मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु पूरा हो गया था आगे चलेंगे चौदह में सूत्र चौदह बोलिए ते ते ह्लाद परिताप परिताप हलाह हलाह पुण्य पुण्य अपुण्य अपुण्य हेतुत्वात् हेतु वे का अर्थ है वे वे जाति आयु और भोग त्रिविपाक जो बताए थे कर्माशय का तीन फल जाति आयु भोग ते बहुवचन ह्लाद परिताप फला ह्लाद का अर्थ है सुख प्रसन्नता सुख परिताप माने दुख फला फल वाले सुख और दुख फल वाले होते हैं वे जाति आयु और भोग सुख और दुख फल वाले होते हैं पुण्य अपुण्य हेतुत्व पुण्य और पाप के कारण से पुण्य के कारण से सुखदायक होते हैं जाति आयु भोग पाप के कारण से वे जाति आयु भोग दुखदायक होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा तो उसको सुख देने वाले जातीय भोग मिलेंगे अर्थात मनुष्य के ये सुखदायक है और पाप करेगा तो उसको दुख देने वाले जातीय भोग मिलेंगे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ऐसे वृक्ष आदि उसको ये जातीय भोग मिलेंगे तो इससे ये पता चला कि हमारा कर्मों का अंतिम फल तो सुख और दुख है आयु भोग से भी आगे सुख दुख मिल रहा है तो अंतिम फल तो सुख दुख हुआ तो ये सिद्धांत याद रखें कर्मों का अंतिम फल है सुख दुख परंतु इस सुख दुख फल के साधन है जाति आयु भोग तो फल के साधन होने से इनको फल नाम से कह देते हैं गौण रूप में इसको फल कह देते हैं क्योंकि ये अंतिम फल के साधन है इन्हीं से हमको आगे सुख दुख मिलने वाला मिलने वाला है तो ये सूत्र का अर्थ हुआ भाष्य पढ़ेंगे ते, ते जन्म आयुर्भोगा जन्म आयुर्भोगा पुण्य हेतुका पुण्य हेतुका सुख भला सुख फला अपुण्य हेतुका अनपुण्य हेतुका दुख फला दुख फला इति ये जन्म आयु और भोग जाति आयु और भोग जाति मतलब शरीर मनुष्य पशु पक्षी आदि जो शरीर है तो वे शरीर आयु और भोग पुण्य के हेतु से पुण्य कर्म के कारण से सुख फला सुख फल वाले हैं और अपुण्य हेतु का पाप कर्म के कारण से वो दुख फल वाले हैं कई बार लोग कहते हैं जी देखो मरना तो कोई भी प्राणी नहीं चाहता गाय घोड़ा कुत्ता सुअर हाथी बंदर कोई भी मरना नहीं चाहता मैंने कहा हाँ, ठीक बात है तो मरना जब कोई नहीं चाहता तो इसका मतलब हर प्राणी अपनी अपनी योनि में खुश है मैंने कहा खुश है तो उसने कहा जब सारे खुश हैं तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है हम मनुष्य बने या सुअर बने या गधे बने या कुछ भी बने मरना तो कोई भी नहीं चाहता मैंने कहा हाँ ये ठीक है मरना कोई नहीं चाहता पर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सब बराबर सुखी दुखी हैं आप जो अर्थ निकाल रहे हैं ये गलत है बोले कैसे ये क्यों गलत है कि सारे बराबर सुखी दुखी हैं मैंने उनको उदाहरण देकर बताया मान लिया आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको बीस हजार रूपये मासिक वेतन मिलता है और मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप वो कंपनी छोड़ो मेरी कंपनी में आओ आपको पच्चीस हजार रूपये दूंगा मासिक उतना ही काम और वेतन पांच हजार अधिक आपका उत्तर क्या है हाँ या ना हाँ, हाँ। मान लो एक दूसरा व्यक्ति आपको ऑफर करता है वो कहता है आप ये कंपनी छोड़ो बीस हजार वाली मेरी कंपनी में आओ मैं आपको पंद्रह हजार दूंगा आपका उत्तर क्या है ना तो क्यों कहा आपने जहां आपको लाभ दिखता है वहां आप क्या बोलते हैं हाँ और जहां आपको हानि दिखती है वहां पर ना ये सिद्धांत याद रखेंगे बोले हाँ तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको ऑफर करता हूं आप जब कहते हैं मनुष्य पशु पक्षी सब बराबर सुखी दुखी हैं तो मैं आपको ऑफर करता हूँ अगले जन्म में आपको सूअर गधा बनाएंगे बोलो हाँ या ना ना इसका मतलब उतना सुखी नहीं है सूअर गधा उतना सुखी नहीं है जितना मनुष्य सुखी है तभी तो आपने ना बोला आप स्वीकार कर रहे इसलिए ये फर्क ऐसा कहना गलत है कि क्या फर्क पड़ता है गधे बने या सुअर बने अपनी योनि में सारे सुखी हैं सारे खुश हैं जीना सभी चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता मरना नहीं चाहता ये तो एक अलग बात है जीवात्मा ऐसा है ईश्वर ने उसकी ऐसी व्यवस्था बना रखी है उसको जो भी शरीर देता है वो उसी में अपने आप को सेट कर लेता है जितना मिला उतने में काम चला लेता है वो ऐसी सेटिंग है इसलिए वो मरना नहीं चाहता वो कहता है चलो जी रहे इतना तो मिल रहा है यही सुख ले लो कुल मिलाकर बहुत दुखी है वो पशु पक्षी गधा कीड़ा मकोड़ा मनुष्य की तुलना में बहुत दुखी है लेकिन जितना भी सुख मिल रहा है वो उसी में गुजारा कर लेता है इसलिए मरना नहीं चाहता तो हमारे इस विचार से व्यवहार से ये सिद्ध होता है कि सभी प्राणी समान रूप से सुखी दुखी नहीं है कम अधीर है और सबसे अधिक सुखी मनुष्य है इसलिए जिसको भी पूछो आप अगले जन्म में अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे तो उत्तर एक ही मिलेगा मनुष्य बनना चाहेंगे इसका मतलब वहां सुख अधिक तो ये सूत्र और भाष्य यही कह रहा है कि सब शरीरों में समान सुख दुख नहीं है जो पुण्य कर्म हम करेंगे तो उसका सुख फल मिलेगा अर्थात वो सुख फल देने वाले जाति आयु भोग मिलेंगे मनुष्य आदि के और पाप कर्म करेंगे तो फिर पशु पक्षी वाले जाति आयु भोग मिलेंगे वो दुख देने वाले ठीक है हाँ। आगे बढ़ते हैं यथा च इदम यथा इदम दुखम दुखम प्रतिकूलात्मक प्रतिकूलात्मक एवं एवं विषय सुख काले विषय सुख काले अपि अपि दुखम दुखम अस्ति एव अस्ति एव प्रतिकूलात्मक प्रतिकूलात्मक योगिन योगिन अब इस पंक्ति को समझने से पहले एक बीच में और पंक्ति मेरी ओर से सुनिए वो इसको समझाएगी पंक्ति इसको स्पष्ट करेगी एक व्यक्ति ने पतंजलि महाराज से कहा कि आपने अभी भी बताया कि पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा जातीय भोग मिलेगा उससे सुख मिलेगा मनुष्य वाला तो अच्छे बढ़िया घर में रहेंगे पंखा कूलर चलाएंगे एसी लगाएंगे और खूब अच्छे मजे से खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे पार्टियों में जाएंगे बढ़िया फैशन करेंगे कार में घूमेंगे हवाई जहाज की सैर करेंगे माल मिठाई खाएंगे खूब मजा करेंगे हम अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और सुख भोगते रहेंगे बुरे काम नहीं करेंगे पशु पक्षी नहीं बनेंगे ऐसा उसने कहा तो पतंजलि महाराज ने कहा कि आप कितने भी अच्छे काम कर लो कितने भी ऊंचे मनुष्य बन जाओ पूरा सुख तो वहां भी नहीं मिलेगा आप फैशन करो कपड़े पहनो डांस करो पार्टी में जाओ खाना खाओ मिठाई खाओ एसी चलाओ कार में घूमो हवाई जहाज में घूमो तो भी आपको कई दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे वहां भी पूरी तरह सुख नहीं है पशु पक्षियों की तुलना में कुछ अधिक है सुख ये ठीक है पूरा सुख वहां भी नहीं है तो कहते हैं जैसे हमको चोट लगती है सर दर्द होता है पांव दर्द होता है पेट दर्द होता है तो दुख होता है हमको अच्छा नहीं लगता कि इसको जल्दी हटाओ ठीक करो बुहार चढ़ गया इसको जल्दी उतारो कैसे भी करके इसको हटाओ यहां से तो जैसे ये दुख जो केवल दुख है वो हमें प्रतिकूल आत्मा है अच्छा नहीं लगता बुरा लगता है खराब लगता है उससे हम छूटना चाहते हैं बचना चाहते हैं तो इसी प्रकार से अब पंक्ति को देखिए यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम जैसे ये शुद्ध दुख हमें अच्छा नहीं लगता अनुकूल नहीं लगता बुरा लगता है इसको हटाना चाहते हैं एवं इसी तरह से योगी ना जो योगी व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति है तत्वज्ञानी व्यक्ति है दूर तक देखता है गहराई से देखता है पूरी बात को गहराई से समझता है उस योगी व्यक्ति को विषय सुख काले अपि विषय का सुख लेते हुए भी उस समय भी मिठाई खाते हुए भी खीर खाते हुए भी हलवा खाते हुए भी एयर कंडीशन का सुख लेते हुए भी उसको प्रतिकूलात्मकम दुखम अस्ति उसको उस समय भी दुख महसूस होता है इसलिए कितने अच्छे बन जाओ मनुष्य बन जाओ बढ़िया मंत्री बन जाओ मिनिस्टर बन जाओ बढ़िया बंगलों में रहो कारों में घूमो तो भी उसमें सुख नहीं है उसमें दुख तब भी दुख है आम आदमी को नहीं दिखता योगी को दिखता है इसलिए वो उसमें भी नहीं चाहता वो सुख भी नहीं चाहता तो ये पक्ष भी अच्छा नहीं है कि आप हमेशा अच्छे काम करते रहो और हमेशा मनुष्य बनते रहो और मजे से खाते पीते रहो और सुख लेते रहो ये भी ठीक नहीं है इसमें भी पूरा सुख नहीं है यहां भी कई सारे दुख हैं कितने दुख हैं चार हम्म। कौन से कितने दुख हैं बोलो कौन से? चार कौन कौन से परिणाम दुख बोलो परिणाम दुख बोलो बोलो दुख दुख दूसरा ताप दुख हाँ तीसरा संस्कार दुख संस्कार दुख चौथा गुण वृत्ति गुण वृत्ति विरोध दुख विरोध दुख हाँ ये चार प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे अगर सुख लिया तो तो योगी व्यक्ति को ये चार प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं इसलिए सांख्य दर्शन में इसी से मिलता जुलता एक सूत्र है वहां भी ये बात बताई गई दोनों समान शास्त्र है तो सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि कोपी सुखी नाम आप भी बोलिए कुत्रापि कोपी सुखी न इस दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी पूरा सुखी नहीं औरों की तुलना में अधिक सुखी है लेकिन पूरा सुखी नहीं है सौ परसेंट सुख नहीं है सौ परसेंट सुख केवल मोक्ष में है या नहीं है जिसने जन्म ले लिया उसको दुख भोगना पड़ेगा वो बच नहीं सकता कम भोगे अधिक भोगे वो अलग प्रश्न है अलग बात है दुख भोगना पड़ेगा दुख का कारण ये जन्म है न्याय दर्शन में बतलाया दुख का कारण जन्म है इसमें भी बताएंगे योग दर्शन में भी आएगा दुख क्यों आता है उसका कारण बताएंगे जन्म तो सुबह बात चल रही थी ना तो पूछ रही थी बहन जी भाई उस स्कूटर वाले का क्या दोष था खामखा ट्रक वाले ने उसको उड़ा दिया तो उसका दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने जन्म लिया बस जन्म लिया तो दुख आएगा अब बच नहीं सकते कहीं ना कहीं से आएगा तो ये बात कहना चाहते हैं संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है और जहां भी कोई थोड़ा बहुत सुखी दिखता भी है थोड़ा बहुत जो सुख है भी सही खाने पीने में पार्टी में डांस में शॉपिंग में घूमने में सैर सपाटे में जो थोड़ा बहुत दुख है सुख है भी सही वो भी दुख से युक्त है संख्य में भी कहा तदपि दुख शबलमिति दुख पक्षे निक्षिपंत विवेचका इसलिए बुद्धिमान उसको भी दुख की कैटेगरी में डाल देते हैं वो सुख दुख से मिश्रित है युक्त है इसलिए उसको दुखी मान लेते हैं छोड़ देते कहते नहीं चाहिए और बहुत अच्छा दृष्टान देते हैं ऋषि लोग इसको समझाने के लिए यथा विष योगात पय विषम इति बुद्धिमान तन्नोपादत्ते जैसे दूध में जहर हो तो जहरीले दूध को व्यक्ति दूध नहीं मानता जहर मानता है ऐसा मान के छोड़ देता है और वो मरने के दुख से बच जाता है ऐसे ही संसार का सुख भी दुख से युक्त है वो भी जहरीली मिठाई तो जो जिसको समझ में आता है वो छोड़ देता है वो उस दुख से बच जाता है और जो इस सुख को नहीं छोड़ता तो उसको जहर भी मारता है उसको दुख भी साथ भोगना पड़ता है अब दोनों रास्ते आपके सामने जो ठीक लगे सो चलो <clears throat> तो अब आगे पढ़ते हैं यहां पर यह बताया कि योगी व्यक्ति को यदि वो सुख लेता है तो उसमें उसको दुख दिखाई देता है उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए वो विषयों का सुख लेता ही नहीं अब ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती वो मिठाई खाता है और सुख नहीं लेता बादाम खाता है और सुख नहीं लेता हवाई जहाज की सैर करता है और सुख नहीं लेता लोगों की समझ में नहीं आती कैसे इसको बताएंगे पढ़िए भूमिका कथम कथम तद उपाद्य कहीं उपपद्य पाठ है कहीं उपाद्य भी है तो योगी व्यक्ति को वो विषयों में दुख क्यों दिखता है कथम कैसे दिखता है इसको सिद्ध करते हैं हम्म। अथवा वो दुख कैसे सिद्ध होता है कि विषयों में भी दुख छिपा हुआ है कैसे सिद्ध होता है इसको अगले सूत्र में बताते हैं सूत्र पंद्रह बोलिए परिणाम परिणाम ताप ताप संस्कार संस्कार दुख दुखैर गुणवृत्ति गुणवृत्ति विरोधाच विरोधाच दुखमे दुखमे सर्व सर्व विवेकिन विवेकिन हम्म, बहुत अच्छा अब देखिए कुल मिलाकर चार दुख हैं पर इन्होंने सीधे चारों को इकट्ठा एक समाज करके नहीं बोला तीन दुखों को अलग किया चौथे को अलग किया इस पर हमने बहुत सोचा जैसे तीन को इकट्ठा कर दिया तो चौथे को भी जोड़ देते अलग क्यों कर दिया इस पर बहुत लंबा चिंतन किया खूब सोचने के बाद एक कारण समझ में आया कि अलग क्यों किया चौथा चौथा अलग इसलिए किया कि यदि कोई व्यक्ति तत्व ज्ञानी व्यक्ति वैराग्यवान व्यक्ति समझ ले कि इन भोगों में यदि सुख लिया तो मुझे परिणाम ताप संस्कार दुख भोगना पड़ेगा ये तीन दुख भोगना पड़ेंगे और ये सोच करके उसने सुख लेना छोड़ दिया खाने पीने घूमने में शहर में सुख लेना छोड़ दिया तो वो इन तीन दुखों से तो बच जाएगा तीन दुखों को भोगने से बच जाएगा छूट सकता है बुद्धिता का प्रयोग करे तो पर चौथे से नहीं छूट सकता वो कुछ भी कर लो आप वो चौथा तो नहीं छोड़ेगा कितने भी बुद्धिमत्ता हो कितनी भी चालाकी हो होशियारी हो चतुराई हो कुछ भी कर लो आप वो चौथा नहीं छोड़ेगा इसलिए उसको अलग कर दिया कि ये अलग प्रकार का दुख है पर तीन दुख अलग प्रकार के हैं तो अब इस सूत्र का अर्थ समझना चाहिए संसार में परिणाम ताप और संस्कार दुख ये तीन दुख तो ये हुए परिणाम दुख और पाप दुख और संस्कार दुख का योग होने से इनका संबंध होने से और चौथा गुण वृत्ति विरोध के कारण भी दुख होने से गुण वृत्ति में विरोध होने से उससे भी दुख होता है इस प्रकार से विवेकी न बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में उसके विचार में दुख में सर्व संसार में सब दुखी दुख है कहीं भी प्योर सुख नहीं सौ प्रतिशत शुद्ध सुख कहीं भी नहीं उसको हर जगह दुख से मिश्रित ही दिखता जो भी दिखता सुख तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में दुख तो शुद्ध है सुख शुद्ध नहीं है दुख तो शुद्ध मिल जाएगा सर में एक डंडा बजेगा पता चल जाएगा चोट लगेगी हाथ पांव टूट जाएगा पता चल जाएगा सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है वहां तो केवल दुख ही दुख है लेकिन केवल सुख नहीं मिलता यहां जितना भी सुख मिलता है खाने पीने घूमने आदि में उसमें ये परिणाम ताप संस्कार आदि लोग मिश्रित रहते हैं इसलिए बुद्धिमान को कहीं भी सुख नहीं दिखता हर जगह दुखी दुख दिखता है जब उसको चारों ओर दुखी दुख दिखता है तीन दुखों से तो बच गया वो क्योंकि उसने सुख लेना छोड़ दिया विषयों का सुख लेना छोड़ दिया तो तीन दुखों से तो बच गया पर चौथे से फिर भी नहीं बच पाया तब वो सोचता है क्या हम दुख भोगना चाहते हैं नहीं, नहीं चाहते और हम इस चौथे दुख से छूटना चाहते हैं तो फिर एक ही रास्ता इस शरीर से छूटो जब तक शरीर रहेगा तब तक ये दुख भोगना पड़ेंगे चौथा दुख भोगना पड़ेगा तो उसका एक ही उपाय अंत में समझ में आता है जब तक शरीर रहेगा तब तक ये गुण वृत्ति विरोध दुख नहीं छोड़ेगा और हम इसे भी भोगना नहीं चाहते तो इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करो इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो आप कोई सोचे चलो शरीर से छुटकारा कर लेंगे सुसाइड कर लेते हैं तो छुटकारा हो जाएगा ये उपाय नहीं है इससे तो दंड मिलेगा ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि इसको मार डालो और अपना जान छुड़ाओ इससे जान ऐसे नहीं छूटेगी इससे कैसे छूटेगी जो अभी पिछले सूत्र में बताया था सती मूल्य तद विपाको जात्याविर्भ होगा जब तक हमारे अविद्यादि क्लेश विद्यमान है तब तक जन्म मिलेगा तो सुसाइड करने से कोई अविद्यादि क्लेश नष्ट नहीं होते तो फिर अगला जन्म मिलेगा ऐसे नहीं छूटेगा अविद्यादि क्लेशों का नाश करो तो छूटेगा हाँ ये ये शरीर मिला ये तो जीना ही पूरा जीवन जैसा मिला है वो तो अपना कर्म फल है जात्यागर होगा जो हमारा कर्मों का फल है वो हमको मिला ही है ये तो पूरा करना ही करना है अब इस जन्म में ऐसे कर्म करने हैं जो निष्काम कर्म हो और वो कब होंगे जब तत्व ज्ञान होगा वैराग्य होगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा निष्काम कर्म हो जाएंगे तो हमारे वो पांच क्लेश नष्ट हो जाएंगे बस ऐसे जन्म रुकेगा जब वो जन्म रुक जाएगा अगला तब ये सारे दुख छूट जाएंगे तो अंतिम उपाय यही रहेगा कि अगला जन्म लेना बंद करो उसका उपाय यह है कि अष्टांग योग का अभ्यास करो ताकि तत्व ज्ञान हो जाए अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाए फिर हमारा मोक्ष होगा ये काम करना है तो अब सूत्र का अर्थ यह है सूत्र का अर्थ तो हो गया बता दिया ना हाँ बुद्धिमान की दृष्टि में सब तरफ दुखी दुख है अब भाष्य को पढ़ते इन दुखों को समझने का प्रयास करेंगे <clears throat> सर्वस्य अयम सर्वस्य अयम రాగానువిద్ధ రాగానువిద్ధ చేతన చేతన అచేతన అచేతన సాధన సాధన అధీన అధీన సుఖానుభవ సుఖానుభవ ఇది ఇది తత్రాస్తి తత్ర అస్తి రాగజ రాగజ కర్మాశయ కర్మాశయ సర్వస్య అయం సుఖానుభవ అస్తి ఇది हर व्यक्ति का सुख का अनुभव होता है जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में उसको सुख का अनुभव होता है ठीक है खाने पीने घूमने देखने सुनने में सैर सपाटे में फैशन में शॉपिंग में पार्टी में डांस में संगीत में उसको हरेक को कहीं ना कहीं सुख का अनुभव होता है किसी को कम होता है किसी को अधिक होता है होता है तो जब ये सुख का अनुभव होता है कैसे होता है चेतन अचेतन साधन अधीना चेतन मतलब जो अपने प्राणी हैं बेटा बेटी भाई बहन माता पिता पोता पोती दादा दादी ऐसे रिश्तेदार उन उनसे भी हमको सुख मिलता है ठीक है और इस प्रकार से अचेतन साधनों से भी मिलता है एयर कंडीशन लगा लिया कार खरीद ली और बढ़िया खाया पिया भोजन बढ़िया स्वादिष्ट बना करके खाया ये जड़ वस्तु है इनसे भी सुख मिलता है चेतन मनुष्य आदि प्राणियों से भी सुख मिलता है कोई अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं कोई तोता पाल लेते हैं कोई खरगोश पाल लेते हैं कोई गाय पाल लेते हैं ऐसे उन प्राणियों से भी उनको सुख मिलता है तो चेतन और अचेतन प्राणियों के अधीन इनके माध्यम से हर व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ सुख का अनुभव होता है ये जो सुख का अनुभव होता है ये रागानुविधा ये राग से युक्त होता है क्योंकि सुख हम पढ़ चुके हैं सुखानुषयी राग जहां सुख होगा वहां राग जरूर होगा सुख भोगने के बाद जो मन पर संस्कार पड़ता है उसको राग कहते हैं तो जब इन जड़ चेतन पदार्थों से हम सुख भोगते हैं तो उनसे राग हो जाता है इससे क्या पता चला तत्रास्ती रागज कर्माशय उस व्यक्ति के जीवन में रागज कर्माशय हो जाता है क्योंकि जब राग हो गया तो उस राग के कारण व्यक्ति आगे भी वो सुख भोगना चाहता है जड़ चेतन पदार्थों से आगे भी वो बार बार सुख लेना चाहता है आगे बार बार सुख लेने के लिए उसको कर्म करने पड़ते हैं और वो जो कर्म होते हैं वो रागज कर्माशय होता है राग के कारण से एक व्यक्ति नौकरी करता है दूसरा व्यक्ति व्यापार करता है पैसे कमाता है क्यों कमाता है उसको अपना परिवार का पालन करना पत्नी बच्चे सबका पालन करना उनके लिए पैसे कमाता है क्यों उनके लिए कमाता है पड़ोसी के लिए क्यों नहीं कमाता हाँ। अपने परिवार वालों से राग है पड़ोसी से राग नहीं है तो बच्चों परिवार के <clears throat> राग से प्रेरित होकर वो कर्म करता है धन कमाना व्यापार करना आदि आदि तो उसके जीवन में ये रागित कर्माशय हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे तथा च तथा दृष्टि दृष्टि दुख साधना दुख साधना मुह्यति च च इति इति द्वेष मोह द्वेष मोह कृतो कृतो अपि अपि अस्ति अस्ति कर्माशय कर्माशय तो जैसे उसके जीवन में रागज कर्माशय है राग से प्रेरित होकर वो कर्म कर रहा है व्यापार कर रहा है पैसे कमा रहा है आदि आदि तथा च उसी तरह से वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज से द्वेष भी करता है जो उसके पड़ोसी उसको परेशान करते हैं कोई मित्र संबंधी ऑफिस वाले ग्राहक लोग व्यापारी लोग जो उसको तंग करते हैं दुख देते हैं उनसे वो द्वेष भी करता है दुखानुषयी द्वेश दुख होगा तो उसके बाद द्वेष होगा तो किसी से द्वेष भी करता है और मोहयती चो हाँ तो कहा कि दुख साधना ने द्वेश दुख के जो साधन है उनसे द्वेष करता है और मोहयती चो किसी किसी के पीछे दीवाना भी होता है मोह पागलपन दीवाना जैसे बच्चे कहते हैं मुझे खिलौना चाहिए उसको कहा बेटा कल दिलाएंगे अब रात का टाइम में बाजार बंद हो गया अब कहां से लाएंगे खिलौना नहीं नहीं मुझे तो अभी चाहिए मुझे तो आज ही चाहिए इसका नाम है मोह इसके बिना मैं नहीं जी सकता मुझे आज ही चाहिए अभी चाहिए कहीं से भी लाओ कैसे भी करो मुझे आज ही चाहिए जैसे बच्चे करते हैं ऐसे बड़े भी करते हैं जैसे वो फिल्मों में चलता है ना हम्म। <laughs> एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं <clears throat> ये सारा मोह है मोह में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि से नहीं सोचता बस वो मन की भावनाओं के पीछे बह जाता है इसको मोह कहते हैं तो इस प्रकार से मोह भी करता है किसी किसी वस्तु में व्यक्ति तो जब द्वेष होता है तो द्वेष के कारण से कर्म करेगा मोह होगा तो मोह के कारण से करेगा इस प्रकार से द्वेष मोह कृतो अपनी अस्थि कर्माशय उस व्यक्ति के जीवन में द्वेषकृत कर्माशय भी होता है और मोहकृत कर्माशय भी होता है तो तीनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं उसके जीवन में कहीं राग से कहीं द्वेष से कहीं मोह से इस प्रकार से तथा चौकतम तथा चौकतम ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है न अनुपहत्य न अनुपहत्य भूतानी भूतानी उपभोग उपभोग संभवती संभवति इति हिंसा कृतो अपि हिंसा अस्ति अस्ति शरीरः शरीरः कर्माशय कर्माशय इति तो किसी आचार्य ने कहा है कि न अनुपात्य भूतानी उपभोग संभवती भूतानी प्राणियों को अनुपहत्य बिना हिंसा किए बिना दुख दिए प्राणियों को दुख दिए बिना उपभोग न संभवती जीना ही कठिन है जीना ही संभव नहीं है अगर हमको जीना है सांस लेना है तो प्राणियों को कुछ तो दुख देना ही पड़ेगा सांस तो लेंगे ना हाँ तो वायु वायु में क्या बैक्टीरिया नहीं होते तो वो कुछ तो जाएंगे अंदर मरेंगे कुछ तो अंदर जाएंगे वायु के साथ साथ कुछ मरेंगे भी पानी पियेंगे जीने के लिए दूध पियेंगे दही खाएंगे मक्खन में दही खाएंगे इन सब में बैक्टीरिया तो होते ही तो ये सारे मरेंगे तो कुछ भी कर लो आप सड़क पे चलेंगे कार में चलेंगे तो पाओ के नीचे कार के पहिए के नीचे कितने वो मेंढक मरेंगे बरसात में <laughs> बरसात में जब पहली पहली बरसात होती है तो खूब मेंढक पैदा होते हैं छोटे छोटे मेंढक सड़क पे आ जाते हैं हम्म। अब जब कार चलती है तो मरते हैं बेचारे बहुत सारे मरते हैं सैकड़ों की संख्या में तो वो मरेंगे पाओ के नीचे चींटी आएगी मरेगी कोई कीड़े मकोड़े मर जाएंगे रसोई में झाड़ू बोचा लगाएंगे उसमें दब जाएंगे मर जाएंगे फिर कॉकरोच आ जाएंगे बाथरूम में रसोई में फिर आपको वहां वो मारना पड़ेगा फ्लिट फ्लिट क्या जो भी <laughs> कीड़े मारने वाला कुछ तो वहां करना पड़ेगा ना नहीं तो हमको जीने नहीं देंगे इसलिए मनुष्य को जीने के लिए कुछ ना कुछ हिंसा करनी ही पड़ती है न चाहते हुए भी करनी पड़ती है झाड़ू पोछा करेंगे उखल मुसल कूटेंगे और फिर वो क्या चक्की चलाएंगे चूल्हा जलाएंगे कुछ तो मरेंगे इसलिए मोहकृत हिंसाकृत कर्माशय भी इस व्यक्ति के जीवन में होता ही है कुछ ना कुछ जितना भी होता है तो इस प्रकार से सब तरह के कर्म हमारे जीवन में होते रहते हैं और फिर इनका आगे हमको फल भोगना पड़ता है और क्या हमारे हाथ से हमारा मतलब ये सांस तो लेनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी इसीलिए तो कर्म खत्म नहीं होते कर्मों का बैलेंस जीरो कभी नहीं होता <laughs> हम मोक्ष में चले जाएंगे तो भी स्टॉक में बचे रहेंगे फिर लौट के आएंगे फिर बचे में कर्म का फल भोगेंगे इसलिए जीरो नहीं होता कुछ ना कुछ होते ही रहेंगे फिर इसमें मेहनत करके क्या <laughs> उससे फायदा यह है मेहनत करने का कि अरबों खरबों वर्षों तक दुख से छूट जाएंगे ये फायदा है मोक्ष का फायदा हाँ मोक्ष में ये लाभ है कि अभी जो लगातार दुख भोगने पड़ रहे हैं ठंडी गर्मी बुखार जुकाम सर्दी आंधी तूफान बाढ़ बीमारी कैंसर टीबी जो भी समस्या आ रही है तो इससे तो छूट जाएंगे ना कम से कम जो हम नहीं जानते अब चिट्ठी ये हाँ मर जाते हम जानते भी नहीं ना हाँ, तो, तो अनजाने में अनजाने में हुआ ना हाँ, तो अनजाने में भी जो गलतियां होती है उसका भी दंड मिलता है उसका दंड कम मिलेगा ये ठीक है कम मिलेगा पर दंड तो मिलेगा ना मिलेगा। आपके इसी पूना नगर में महर्षि दयानंद जी के प्रवचन चल रहे थे उस जमाने में तो उन्होंने शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि पूना पे प्रवचन करते हुए उन्होंने ये बात कही कि एक व्यक्ति अनजाने में अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या चोट नहीं लगेगी <laughs> बरसात का टाइम उसको पता नहीं कि यहाँ गड्ढा है और वो जा रहा था साइकिल पे या स्कूटर पे कैसे भी और वो गड्ढे में गिर गया उसको पता नहीं था तो क्या चोट नहीं लगेगी लगेगी ना तो अनजाने में गलती हुई दंड तो मिलेगा जानबूझ के करो ज्यादा दंड मिलेगा अनजाने में करो कम मिलेगा ये व्यवस्था है वेदों में है वहां भी ऐसा ही आपने इरादे से चाकू मारा हत्या के इरादे से तो दंड अधिक मिलेगा और आप ऐसे कुछ सब्जी वब्जी छील रहे थे तो बाई चांस लग गया और बेचारा मर गया तो उसका दंड कम मिलेगा या अपनी रक्षा में मारा चाकू मार दिया अपनी रक्षा करने के लिए तो शायद बरी भी हो जाएंगे नहीं भी मिलेगा तो अलग अलग परिस्थिति में कर्म का अलग अलग फल है तो ऐसे हम अब मकोड़ों को ऐसे जानबूझ के मारेंगे <laughs> चप्पल लेके जैसे कई बच्चे मारते हैं ना उनको पता नहीं होता कि इनको मारना चाहिए या नहीं वो एक मकोड़ा आया उसने चप्पल उठाई और दे दनादन उसको ऐसे मारना शुरू करते हैं <laughs> फिर माता पिता समझाते नहीं बेटा ऐसा नहीं करो इनको नहीं मारना चाहिए तो कोई जानबूझ के मारेगा कोई अनजाने में मारेगा तो दंड तो मिलेगा और अनजाने भी, भी गलती होती है तो भी वो हमारा दोष नहीं है ऐसा नहीं हाँ, दोष कारण उस का को दूर करना हाँ। करते नहीं स्वामी जी जैसे अभी घर में कॉकरोच हो गए अब कॉकरोच रखना अच्छा नहीं रहता हाँ, नहीं है ना अब ऐसे छोड़ेंगे तो और बढ़ेंगे वो हम्म। तो मारना <laughs> मारना पड़ेगा मजबूरी है मजबूरी है मजबूरी मानकर मारिए द्वेष से नहीं नहीं नहीं वही मजबूरी में ही मारना पड़ेगा हमारो हाँ, कोई बात नहीं इधर पाप लगेगा इधर पुण्य भी कमा लेंगे इधर हवन कर लेंगे उसका पुण्य बढ़ जाएगा <laughs> ये पंचमाया जी इसीलिए तो बताए कि इधर मारना पड़ता है न चाहते हुए भी मारना पड़ता है तो इधर पाप तो बढ़ ही रहा है तो थोड़ा पुण्य भी बढ़ा लो पंचमा जी करो थोड़ा पुण्य भी बढ़ जाए ताकि बैलेंस बना रहे केवल दुखी दुख ना भोगना पड़े कुछ सुख भी मिल जाए इसलिए पंचमा जी का विधान किया पंचमहायज्ञ से वो पाप कैंसिल नहीं होगा हाँ अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का बुरा फल वो कैंसिल नहीं होगा विनाश हो सकता हाँ दब जाएगा देर में मिलेगा मिलेगा जरूर और ये होगा कि इधर पाप तो हो ही रहा है प्रदूषण हम कर ही रहे हैं गाड़ी चलाते हैं मोटर गाड़ी चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं बाइक चलाते हैं तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है उसका तो पाप लग ही रहा है तो थोड़ा यज्ञ करके सुगंधी भी फैला लो उसका पुण्य भी कमा लो इस तरह से बैलेंस करने के लिए हमको पंचमा यज्ञ का विधान किया कि रोज पंचमा यज्ञ करो पुण्य कमाओ ताकि आपका सुख का बैलेंस अधिक रहे दुख ना भोगना पड़े दुख कम भोगना पड़े सुख अधिक मिले इसलिए ये विधान किया तो ये कर्म फल की बात बताई <coughs> तो जीवन में सब तरह के कर्म होते रहेंगे राग वाले भी द्वेष वाले भी मोह वाले भी और न चाहते हुए भी हिंसा होती रहेगी ये कर्म जमा होते रहेंगे और जब तक जन्म लेंगे इसका फल भोगना पड़ेगा इसलिए अगर इनसे बचना हो तो जरा सावधान हो जाओ और तत्व ज्ञान उत्पन्न करो वैराग्य उत्पन्न करो निष्काम कर्म करो अविद्यादि पांच क्लेशों को नष्ट करो और मोक्ष में जाओ और वो जो व्यक्ति कह रहा था कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे हमेशा खाएंगे पिएंगे और सुख लेते रहेंगे उसके लिए अगला वाक्य बोलिए विषय सुखम विषय सुखम च अविद्या अविद्या इति उक्तम ये याद करने जैसा है वाक्य बहुत बढ़िया है विषय सुखम च अविद्या जो व्यक्ति ये मानता है कि विषयों में सुख लेंगे बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे सुनेंगे रूप रसगंध पांच विषयों का सुख लेंगे वो अविद्या में है विषय सुखम च अविद्या उत्तम विषयों में सुख मानना शुद्ध सुख मानना अविद्या है क्यों अविद्या है क्योंकि उसमें ये तीन चार तरह के दुख हैं तीन चार प्रकार के दुख हैं और वो उसको शुद्ध सुख मान के भोग रहा है यही तो अविद्या है कैसे हैं वो दुख अब इसकी व्याख्या करते हैं पहला है परिणाम दुख उसकी व्याख्या करते हैं बोलिए या, या। भोगेशु भोगेशु इंद्रियाणाम इंद्रिया तृप्तेह तृप्ते उपशांति उपशांति तत्सुखम तत्सुखम ये है लौकिक सुख जिसको लोग सुख मानते हैं और सुख के नाम से व्यवहार करते हैं उसका स्वरूप बतलाया भोगेशु भोगों में भोगेशु भोगों में इंद्रिया नाम इंद्रियों की तृप्ते तृप्ति होने से जैसे रसना इंद्रिय है और इच्छा हो रही है कि भाई कुछ मिठाई खाएं इसका सुख ले रसगुल्ला गुलाब जामुन कोई और दूसरी मिठाई जो भी हर एक को पसंद होती है अपनी अलग अलग तो उसको इच्छा हो रही है कि इन भोगों में थोड़ा सुख ले लें इस भावना से इस इच्छा से वो मिठाई खाता है रसगुल्ला खाता है गुलाब जामुन खाता है सेब खाता है केला खाता है अंगूर खाता है जो भी खाता है ऐसा खाने से उसकी थोड़ी थोड़ी तृप्ति होती है इंद्री की तो इंद्रियों की तृप्ति होने से या उप शांति जो थोड़ी सी शांति होती है थोड़ा अच्छा लगता है वाह चार रसगुल्ले खाए वाह मजा आ गया बहुत अच्छे से रसगुल्ले ऐसे कभी कभी मिलते हैं आज तो छह महीने बाद इतने अच्छे टेस्टी रसगुल्ले मिले पिछले छह महीने में ऐसे नहीं मिले खाने को <laughs> व्यक्ति ऐसा बोलता है तो ये जो उसको थोड़ा अच्छा लगता है इसका नाम है सुखम ये है सुख थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है फिर कहते हैं या या लौल्यात लौल्यात अनुपशांति ही अनुपशांति ही तब दुखम तब दुखम लवल्यात का अर्थ है चंचलता से इंद्रियों में जो चंचलता से अनुप शांति शांति नहीं हो पाई उसका बड़ा मूड था रसगुल्ले खाने का और वो उसकी बहुत फेवरेट आइटम थी एक दुकान पे गए दो दुकान पे गए चार दुकान पे गए कहीं भी नहीं मिला त्योहार का दिन था सारा माल बिक गया खत्म हो गया आप देर से आए तो अब थोड़ी मिले सब बिक गया तो अब उसका मूड था बहुत खाने का त्योहार का दिन है आज मिठाई क्यों नहीं खाएंगे पर पहुंचे देर से इसलिए माल खत्म हो गया इस कारण से अब वो रसना इंद्री में तो चंचलता बनी हुई है वो खलबलाट मची हुई है कि लाओ लाओ लाओ रसगुल्ला लाओ <laughs> मिलता नहीं हो तो न मिलने से जो अनुप शांति है उसको कुछ खाने पीने को मिला नहीं तो उसको शांति महसूस नहीं हुई तद दुखम ये दुख है उसको बड़ा दुख होता है आज बहुत मूड था खाने का फिर भी नहीं मिला मजा नहीं आया आज का त्योहार तो बेकार चला गया व्यक्ति ये अनुभव करता है जब त्योहार के दिन मिठाई ना मिले खाने को तो वो कहता आज का दिन तो बेकार हो गया ये त्योहार ही हमारा बेकार हो गया फेल हो गया <laughs> कोई मजा नहीं आया तो इसका नाम है दुख फिर कहते हैं न च न च इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम भोगाभ्यास भोगाभ्यास वैतृष्ण्यम वैतृष्ण्यम कर्तुम कर्तुम शक्यम शक्यम कहते हैं आप कितना भी भोग भोग लो विषयों का सुख भोग लो एक बार दो बार बीस बार पचास बार सौ बार कितनी बार भी भोगो भोगों का अभ्यास करते रहने से बार बार भोगने से विषयों को इंद्रियाणाम वैतृष्ण्यम कर तुम न शक्यम इंद्रियों को इच्छा रहित नहीं बनाया जा, जा सकता बिल्कुल असंभव वो कई बार बात चलती है ना रजनीश महाराज की रजनीश महाराज ने क्या बोला खूब भोगो भोगो जम के भोगो एक दिन आप थक जाएंगे और फिर आपको वैराग्य हो जाएगा फिर आप छोड़ देंगे ऐसा नहीं है व्यास जी मना कर रहे हैं कितना भी भोगो नहीं थकेंगे थोड़ी देर के लिए थक जाएंगे छह घंटे बाद फिर जोश उठेगा दो दिन के बाद फिर जोश आएगा एक हफ्ते बाद फिर इच्छा होगी आप थकने वाले नहीं है तो कितना भी भोगों को भोगे भोगाभ्यास करते करते इंद्रियों को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता असंभव है तो ये जो लोग इस पैटर्न पे चल रहे हैं कि खूब भोगो एक दिन हम थक जाएंगे गलत है ये उसके साथ एक और दृष्टिकोण चाहिए तब थकेंगे वो दृष्टिकोण उन्होंने नहीं सिखाया अच्छा यूं भी तो लोग सारे भोग ही रहे दिन रात <laughs> कोई कमी थोड़ी है किसको वैराग्य होगा <laughs> किसी को भी नहीं हुआ अस्सी साल के नब्बे साल के बूढ़े को हमने देखा है नब्बे भी पचानवे साल के बूढ़े व्यक्ति को देखा है अभी भी वो पैसे ब्याज पर देता है अपने पैसे अलग रखता है अभी उसको कितनी आशा है पचानवे साल की उम्र अभी भी पैसे ब्याज पर दे रहा है कि अभी मैं और पैसे कमाऊंगा <laughs> कहा हुआ वैराग्य <clears throat> सारा जीवन खाया पिया भोगा फिर भी तृप्ति कहा हुई तो सारी दुनिया लगी है दिन रात भोगने में पर वैराग्य नहीं हो रहा इसलिए व्यास जी ठीक कहते ऐसे भोगों का अभ्यास करते रहो तो कोई तृप्ति होने वाली नहीं है इच्छाओं इच्छा रहित नहीं हो सकते आप वैराग्य नहीं हो कस्मात कस्मात यतो यतो भोगाभ्यासम भोगाभ्यासम अनु अनु विवर्धनते विवर्धनते रागा रागा कौशलानी च कौशलानी च इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणाम् इति <coughs> <coughs> बहुत बढ़िया साइकोलॉजी की बात है मनोविज्ञान की भोगों को भोगने से वैराग्य क्यों नहीं होगा उसका कारण बताते हैं क्योंकि भोगाभ्यासम अनु भोगाभ्यास के पश्चात बार बार भोगों को भोगने से रागा विवर्धन से राग तो और बढ़ेगा तो जितना आप सुख लेंगे सुखानुष ही रहेगा तो बार बार भोगों को भोगने से राग और बढ़ेगा कौशलानी च थी इंद्रियों की कुशलता तो बढ़ जाएगी भोगने में क्षमता तो बढ़ जाएगी पर वैराग्य नहीं होगा पहले व्यक्ति चार रसगुल्ले खाता है फिर धीरे धीरे वो अभ्यास करता है फिर छह खाता है फिर आठ खाता है फिर दस खाता है और अभ्यास करते करते दस किलो मिठाई खाता <laughs> आपने देखे कभी दस किलो मिठाई खाने वाले ने देखे मथुरा में चलो मिलेंगे हाँ, मथुरा के पंडित दस दस किलो पंद्रह पंद्रह किलो रबड़ी मिठाई खा जाते हैं डायबिटीज नहीं होता है नहीं होता है डायबिटीज वो खाते हैं और उलट देते हैं खाते हैं और उलट देते फिर दूसरा खा के आते बिजनेस बना रखा है खाने का बिजनेस है जितना मिठाई खाओ उतने पैसे ज्यादा मिलते हैं दक्षिणा भी मिलती है ऊपर से कोई आज से करीब 28-30 साल पुरानी बात तब हम गुरु जी के साथ घूमते थे देश भर में प्रचार करते थे शिविर लगाते थे पढ़ते भी थे तो घूमते घूमते मथुरा पहुंचे वहां शिविर लगाया आठ दस दिन का तो आश्रम में ठहरे थे जहां शिविर था हमने उनसे पूछा तब हम पहली बार गए थे मथुरा तो हमने उनसे पूछा कि हमने सुना है यहाँ पर ऐसे ऐसे पंडे होते हैं जो दस किलो मिठाई खाते हैं पंद्रह किलो मिठाई खाते हैं हमने ऐसा सुना है क्या ये सच बात है बोले हाँ बिल्कुल सच बात है आपको शंका क्यों है हमने कहा हमने कभी देखे नहीं इसलिए हमको शंका है इतनी मिठाई कोई खाता नहीं तो इतनी मिठाई कोई खाता नहीं इसलिए हमको शंका है क्या इतनी मिठाई खाने वाले होते हैं लोग बोले हाँ बिल्कुल होते हैं तो हमने कहा हम उनका दर्शन करना चाहते हैं हम दिखाओ कैसे होते हैं बोले उनके दर्शन इतने सस्ते नहीं मैंने कहा क्या मतलब कि ऐसे नहीं होते दर्शन तो फिर कैसे होते पंद्रह किलो मिठाई मंगाओ निमंत्रण दो तब दर्शन होंगे <laughs> ऐसे नहीं दिखेंगे वो अपने घर पे पंद्रह किलो मिठाई मंगाओ फिर उनको निमंत्रण दो जी हमारे आइए मिठाई खाने के लिए तब आएंगे तब आप देख पाएंगे तो हमने कहा ये तो अपने बस का नहीं है हम तो भिक्षा मांग कर रोटी खाते हैं ब्रह्मचारी हम मिठाई कहां से लाएंगे पंद्रह किलो हम तो रोटी भी भिक्षा मांग के खाते हैं कोई हमारी इनकम नहीं है कोई व्यापार नहीं है कोई बिजनेस नहीं है पढ़ते हैं पढ़ाते हैं जो मिल जाता है खा लेते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम पंद्रह किलो मिठाई खिलाए तो बोले फिर आपको उनका दर्शन नहीं हो सकता <laughs> जाओ फिर नहीं होने वाला पर यह है सच बात कि इतनी मिठाई खाने वाले पंडे हैं यहां ये सच कहा उन्होंने तो ये बात थी कि खाते खाते खाते व्यक्ति इतना अभ्यास कर लेता है कि उसकी खाने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है वो 12-15 किलो मिठाई भी खा जाए तो भी उसको वैराग्य नहीं होता तृप्ति नहीं होती ऐसा कभी अनुभव नहीं करता कि बस बहुत खाली मिठाई आज के बाद कभी नहीं खाए ऐसा वैराग्य नहीं होता उसको तो ये मनोविज्ञान की बात है किसी भी विषय का आप अभ्यास करते जाइए इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी पर वैराग्य नहीं होगा तृप्ति नहीं होगी सिगरेट पीने वाले पहले शुरू में एक सिगरेट पीते हैं एक भी नहीं पी सकते खांसी आती है कड़वी लगती है छोड़ देते धीरे धीरे अभ्यास करते हैं थोड़ा थोड़ा रोज पीते जाते हैं और पीते पीते दो डिब्बी पी जाते हैं बाद में इतनी क्षमता बढ़ जाती है तीस चालीस सिगरेट पी जाते हैं तो ये कहते हैं खाने पीने भोगने से आपकी इंद्रियों की क्षमता भले ही बढ़ जाएगी इच्छा खत्म नहीं होगी राव और बढ़ेगा तस्मात् तस्मात् अनुपाय अनुपाय सुखस्य सुखस्य भोगाभ्यासः भोगाभ्यासः इति इति इसलिए भोगों का अभ्यास करना ये सुख का उपाय नहीं है कितनी बढ़िया बात बताई मानव लाभ लेने वाला तो बहुत लाभ उठा सकता है एक सेंटेंस में इतनी बढ़िया बात बताई आप सुख चाहते हैं तो ये सुख का उपाय नहीं है भोगों का अभ्यास करना इससे तो और राग बढ़ेगा और आसक्ति बढ़ेगी और तृप्ति तो होती नहीं भोगने की क्षमता भले बढ़ जाएगी शांति तो मिलती नहीं तो ये कोई सुख का उपाय नहीं है इसलिए भोगों का अभ्यास न करें जीवन रक्षा के लिए खाएं खाने को मना नहीं गुलाब जामुन खाओ मिठाई खाओ फल खाओ जूस पियो दूध पियो मलाई खाओ मक्खन खाओ सब खाओ सुख मत लो सुख मत लो वरना आपको ये दुख भोगने पड़ेंगे जीने के लिए खा लो सब खाओ कोई मना थोड़ी कार में बैठो हवाई जहाज में बैठो एसी का उपयोग करो अच्छी तरह से शरीर रक्षा के लिए आप इन चीजों का उपयोग करो क्षमता बढ़ाओ देश की सेवा करो परोपकार करो समाज सेवा करो परमात्मा का ध्यान करो विद्या पढ़ो सारे काम करो इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए क्षमता की वृद्धि के लिए शरीर की सुरक्षा के लिए जीवन की रक्षा के लिए इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं सुख लेने के उद्देश्य से नहीं यदि वो किया तो परिणाम खराब इस प्रकार से ये हानिकारक हो जाएंगे तो कहा सुख का उपाय भोगाभ्यास नहीं है एक दृष्टांत से समझाते हैं स खलु अयम स खलु अयम वृश्चिक वृश्चिक विषभीत विषभीत इव इव आशी विषेण दष्टो दष्टो यह यह सुखार्थी सुखार्थी विषयानुवासितो विषयानुवासितो महति महति दुख पंके दुख पंके निमग्न निमग्न इति इति एक दृष्टांत बताते हैं कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था शाम का टाइम था कुछ अंधेरा सा था और उसको ध्यान नहीं रहा चलते चलते आगे कोई चौड़ा सा गड्ढा था कुआं जैसा सूखा हुआ पानी वानी नहीं था कोई आठ दस फीट गहरा होगा तो उसका ध्यान नहीं गया वो उस गड्ढे में गिर गया आठ दस फीट गहरे गड्ढे में गिर गया तो उस कुएं के अंदर उसने देखा रे यहां तो बिच्छू है काट खाएगा हम्म तो बिच्छू ना काट खाए उसके डर से वो पीछे सरकने लगा कि कभी काट ना ले ऐसे ऐसे पीछे सरकता आया उसको पता नहीं था यहां सांप काला <laughs> दूसरी तरफ तो बिच्छू से डरा और सांप ने काटा है कौन सा घाटे वाला है बिच्छू वाला है सांप वाला ज्यादा नुकसान किसमें सांप वाले ज्यादा नुकसान है हम्म। तो-, तो बिच्छू के डर से भागा और सांप ने काटा है तो और ज्यादा नुकसान में रहा तो जैसे वो व्यक्ति ज्यादा घाटे में रहा जो बिच्छू से डरकर सांप से काट लिया गया वैसे ही ये व्यक्ति जो भोगों को नहीं भोगता है मन पर संयम रखता है इंद्रियों पर कंट्रोल करता है और मन में इच्छा उठती है कि भोग ले भोग ले वो कहता है नहीं नहीं नहीं ठीक है नहीं इसमें परिणाम दुख तो भोगना पड़ेगा इसमें राग बढ़ जाएगा इसमें यह समस्या आएगी वो समस्या आएगी कहता नहीं नहीं नहीं भोगना तो इच्छा तो अंदर उठती रहती है वो उसको रोकता रहता है कि नहीं नहीं नहीं भोगना है तो न भोगने के कारण उसको वो इच्छा दुख तो देती रहती है ये है बिच्छू का काटना हम्म। वो दुख देती रहती है इच्छाएं वो ब्रेक लगाता रहता है नहीं भोगना और दूसरा व्यक्ति वो क्या करता है जब इच्छा उठती है तो भोग लेता है मिठाई खा लेता है सुख ले लेता है घूम लेता है सारे इंद्रियों के सुख लेता रहता है इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सुख लेता रहता है तो वो उस व्यक्ति की तरह है जिसको सांप ने काट खाया अब दो में से कौन ज्यादा घाटे में रहा जो इंद्रियों को दबाता रहा कंट्रोल करता रहा वो या जिसने भोगों को भोग लिया वो कौन घाटे में रहा जिसने भोगों को भोग लिया भोग लिया वो सांप की तरह है सांप ने काट खाया उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा यही नुकसान उठाना पड़ेगा कि राग बढ़ जाएगा क्षमता बढ़ जाएगी भोगने की तृप्ति तो होगी नहीं इच्छाएं तो शांत होंगी नहीं ये नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए वो व्यक्ति उसके समान है जो भोगों को भोग लेता है सांप के द्वारा काटे गए व्यक्ति के समान है अब पंक्ति को देखिए वह यह व्यक्ति वृश्चिक विष भीता इव बिच्छू के विष से डरा हुआ सा उसके तुल्य आशी विषेण दष्टा आशी कहते सांप को तो सांप के जहर से काट काट लिया गया मतलब सांप ने काट लिया उसको और डंक मार दिया तो सांप का जहर ज्यादा खतरनाक है वो तो मर ही जाएगा बिच्छू काटे तो चिल्लाएगा तो सही दर्द तो होगा पर मरेगा नहीं बच तो जाएगा कम से कम तो वो कम नुकसान वाला है तो जो सुखार्थी सुख भोगने वाला सुख की इच्छा वाला व्यक्ति विषयानुवासिता विषयों के पीछे पड़ा हुआ विषयों को भोगने वाला सुख के उद्देश्य से भोगने वाला महती दुख पंखे निमग्न नहीं थी वो बड़े दुख के कीचड़ में डूब जाता है दुख के सागर में डूब जाता है उसको ज्यादा दुख भोगना पड़ता है ये परिणाम दुख उसको तंग करता रहता है उसको इच्छा तो शांत होती नहीं इच्छा फिर भी अंदर से काटती रहती है भोगने के बाद भी काटती रहती है तो वो बेचारा ज्यादा दुखी होता है और वो लगातार भोगता रहेगा वर्षों तक और वर्षों तक वो परिणाम दुख से परेशान होता रहेगा दूसरे पक्ष में जो व्यक्ति भोगों को नहीं भोग रहा है कंट्रोल कर रहा है मन पर इंद्रियों पर वो कहता नहीं नहीं भोगना नहीं भोगना इसका परिणाम अच्छा नहीं परेशानी होगी अशांति अब भी हो रही है अशांति फिर भी होगी भोगने के बाद भी होगी तो न भोग कर थोड़ी सी अशांति सह लो वो ऐसे सोचता है भोगने के बाद भी अशांति सहनी पड़ेगी और न भोगने पर भी सहनी पड़ेगी तो वो सोचता है न भोगो यही सह लो थोड़ा सा और ऐसा अभ्यास करते करते कुछ समय के बाद कुछ वर्षों के बाद वो जो इच्छाएं दुख दे रही थी वो देना बंद कर देती तो ये कम घाटे मेरा कुछ दिन परेशान हुआ फिर आगे चल के उसका संयम हो गया उसको समझ में आ गया अब वो इच्छाएं उसको परेशान नहीं करती इच्छाएं उठनी बंद हो गई लेकिन जो भोगों को भोग रहा है उसकी तो चालू ही उसकी तो खत्म हो ही नहीं इसलिए वो ज्यादा घाटे में रहा ये समझाना चाहते तो जो सुख भोगने के उद्देश्य से विषयों का सुख ले लेता है वो गहरे दुख के कीचड़ में डूबता है उसको ज्यादा परेशानी भोगनी पड़ती है वो घाटे में रहता है आगे बढ़िए ऐशा ऐशा परिणाम दुखता परिणाम दुखता नाम नाम प्रतिकूला प्रतिकूला सुखावस्थाया सुखावस्थाया अपि अपि योगिनम एव योगिनम एव क्लिश्नाति क्लिश्नाति कहते हैं इसका नाम है परिणाम दुखता परिणाम तो दुख ही रहा भोगने पर भी दुख ही रहा परिणाम होता है बाद में तो विषयों का सुख भोगने के बाद भी परेशानी रही तो क्या लाभ हुआ इससे तो नहीं भोगते अच्छा था इसलिए जो नहीं भोगता वो ठीक रहता है थोड़े दिनों में ठीक ठाक हो जाता है और भोगने वाला ज्यादा घाटे में रहता है इसका नाम है परिणाम दुखता मतलब मन में जो इच्छा थी सुख भोगने की वो इच्छा शांत नहीं हुई परिणाम में अशांति बनी ही रही इसका नाम परिणाम दुख है ठीक है तो ये परिणाम दुखता प्रतिकूला ये प्रतिकूल है अच्छी नहीं है हमारे अनुकूल नहीं है सुखावस्थायाम अपनी योगिनम एवं कृष्णाती योगी व्यक्ति यदि सुख लेगा तो सुख लेते समय भी वो उसको परेशान करती है उसको पहले से दिख रहा है कि इसका परिणाम खराब आएगा पहले से दिख रहा है उसको इसलिए वो सोचता है कि इसको ना ही भोगो ठीक है मतलब जीने के लिए खा लो सुख मत लो ऐसा वो सोचता है तो वो परिणाम दुख से बच जाएगा सिर्फ जीने के लिए खाएगा जीने के लिए यात्रा करेगा जीने के लिए सारे काम करेगा सुख नहीं लेगा तो ये योगी को ही परेशान करती है और दूसरों को नहीं क्योंकि उनको दिखता ही नहीं जैसे एक व्यक्ति जानता है कि ये बिजली की तार है इसमें 220 वोल्ट का करंट है अगर इसको छू लिया तो क्या होगा उसको परिणाम दिखता है पहले से तो वो नहीं छुएगा दिखता है ना पहले से तो योगी व्यक्ति को पहले से दिखता है कि मैंने इसका सुख लिया तो मैं फंस जाऊंगा <laughs> ये राग मुझे दबाएगा और फिर मैं परेशान होता रहूंगा इसलिए मुझे ये करना ही नहीं कहा जैसे हम बिजली की तार नहीं छूते उसका परिणाम पहले से सोच लेते हैं योगी व्यक्ति विषयों का सुख का परिणाम पहले से सोच लेता इसलिए वो सुख लेता ही नहीं आज से तीस बत्तीस पैंतीस साल पहले जब हमारा गुरु जी से परिचय हुआ तब गुरु जी कहते थे मैं बादाम खाता हूं पर सुख नहीं लेता बात समझ में नहीं आई समझ में नहीं आई आप बादाम खाते और सुख नहीं लेते बोले मैं मिठाई खाता हूं मैं सुख नहीं लेता मैं खीर पूरी खाता हूं मैं सुख नहीं लेता मैंने कहा गुरु जी समझ में नहीं आई ये नहीं कहा आप झूठ बोलते आप गलत कह रहे हैं ये नहीं कहा ये कहा कि हमको समझ में नहीं आई आप ठीक कह रहे होंगे पर हमें तो समझ में नहीं आई ऐसा कैसे हो सकता है आदमी मिठाई खाए बादाम खाए और सुख नहीं ले कैसे हो सकता है बोले हो सकता है हमने कहा कैसे हो सकता है समझाइए तो उन्होंने समझाया एक व्यापारी था बड़ा व्यापारी था पैसे खूब कमाता था बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था लाखों करोड़ों का बिजनेस था वो दोपहर के समय लंच कर रहा था अच्छा भोजन खा रहा था बढ़िया स्वादिष्ट सुख लेकर के और आधा भोजन खा चुका था बीच में समाचार आया टेलीफोन से सेठ जी आपका पचास लाख का नुकसान हो गया हाँ, <laughs> आपका पचास लाख का नुकसान हो गया सुन लिया समाचार अब वो क्या कर रहा था भोजन कर रहा था कैसा भोजन खा रहा था बढ़िया स्वादिष्ट सुख लेकर के खा रहा था ये समाचार सुनने के बाद अब वो सुख लेके खा पाएगा अब कहा गया सुख सारा गायब हो गया ना <laughs> अब बिना सुख लिए खा रहा है कि नहीं तो गुरुजी ने समझाया कि बिना सुख लिए खाया जा सकता है असंभव नहीं है तो इस एक दृष्टांत से हमको समझ में आया कि हाँ पॉसिबल ऐसा हो सकता है बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है असंभव तो नहीं है इतनी बात तो उसी दिन समझ में आ गई फिर हमने पूछा गुरु चलो वो तो ठीक है उसको तो एक झटका लगा कि पचास लाख का नुकसान हो गया तो झटके से उसका दुख बढ़ गया और उस दुख के कारण वो सुख नहीं ले पा रहा तो हम इस सुख को कैसे रोकेंगे हमें कोई रोज थोड़ी झटका लगेगा ऐसा <laughs> कि आज नुकसान हो गया आज भाई मर गया आज मां मर गई आज मकान गिर गया रोज ऐसे झटके थोड़ी लगेंगे तो हम कैसे रोकेंगे इस सुख को <clears throat> बोले उसके रास्ते बताएंगे उपाय बताएंगे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए <clears throat> एक उपाय बताया कि फरमाइश करना बंद करो पेड़ के पकौड़े बनाओ आज राजमा चावल बनाओ आज खीर बनाओ चावल की हम्म। और उसमें पिस्ता काजू बादाम डालो उसमें केसर भी डालो इलायची भी डालो आज ये रसगुल्ले मंगाओ आज गुलाब जामुन मंगाओ ये फरमाइश करना बंद करो आप फरमाइश क्यों करते हैं सुख लेने के लिए अगर सुख को ब्रेक लगानी है सुख नहीं लेना तो फरमाइश बंद करो तो फिर क्या खाएं कैसे खाएं बोले खाओ जो मिले सो खाओ फरमाइश मत करो मिल गया तो खा लो नहीं मिला तो कोई बात नहीं मन में इच्छा मत करो कि आज मुझे इस चीज का सुख लेना है आज इस चीज का सुख लेना है ये मत करो ये एक उपाय है हमने कहा ठीक है तो हमने तब से नियम बना लिया आज से फरमाइश बंद तो बत्तीस चौंतीस साल हो गए हमने फरमाइश बंद कर दी कभी फरमाइश नहीं की लोग हमसे पूछते हैं गुरु क्या खाएंगे हम कहेंगे जो आप खिलाएंगे <laughs> जो आप खाएंगे वो हम भी खा लेंगे सीधे साधी दाल रोटी बना लो हम भी खा लेंगे कोई फरमाइश नहीं तो एक उपाय ये बताया वो किया दूसरा उपाय बताया कि कभी कभी उस चीज को खाना बंद कर दो थोड़े दिन के लिए एक महीने के लिए पंद्रह दिन के लिए जिस चीज में आप सुख लेते हैं बहुत रुचि है आकर्षण है फेवरेट आइटम है उसको कुछ दिन के लिए मत खाओ फिर अपना परीक्षण करो कि इसके बिना हमारा जीवन कैसा रहा पंद्रह दिन महीना कैसा जिया कष्ट तो नहीं हुआ या आसानी से निकल गया बीस दिन महीना ऐसे परीक्षण करो तो हमने कहा ठीक है तो हमने ऐसे कई प्रयोग किए एक महीने के लिए दूध बंद कर दिया सुबह भी नहीं पीना रात को भी नहीं पीना बाकी दाल रोटी खाओ सब्जी खाओ दूध बंद एक महीने तक फिर देखा कैसा रहा ठीक निकल गया कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ आसानी से एक महीना पार हो गया ऐसा नहीं लगा कि कुछ खाली खाली चल रहा जीवन कुछ मजा नहीं आ रहा दूध के बिना कोई हम परेशान हो गए या बीमार हो गए या कुछ ऐसी समस्या आ गई कुछ नहीं हुआ तो हमें बड़ा उत्साह मिला हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो हम कर सकते हैं तो हमारे बस का है बड़ा उत्साह मिला ऐसे कई प्रयोग किए फिर हम क्या करते थे उन दिनों व्यायाम करते थे दंड वैठक लगाते थे <laughs> और घी खाते थे ऊपर से दाल सब्जी में डाल डाल के तीस चालीस ग्राम रोज घी खाते थे तो महीने में कभी दो किलो ढाई किलो तीन किलो भी खा जाते थे फिर क्या किया एक महीने का संकल्प किया कि जो हम दाल सब्जी में ऊपर से घी डालते ना ये बंद करो कभी ऐसा ना हो इसकी आदत पड़ जाए कल को नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे तो एक महीना इसके बिना ही चलाएंगे दंड बैठक लगाएंगे व्यायाम करेंगे पर वे ऊपर से घी नहीं खाएंगे जितना दाल छोंकड़ में लगता है उतना ठीक है <clears throat> छोंक में जितना लगा उतना खा लेंगे तो एक महीना घी बंद कर दिया फिर परीक्षण किया कैसा रहा ठीक रहा कोई ज्यादा समस्या नहीं आई तो ऐसे ऐसे हिम्मत बढ़ती गई उत्साह बढ़ता गया कॉन्फिडेंस आता गया और हम एक एक करके कई चीजें हमने छोड़ छाड़ दी और उसके बिना ही जीते रहे और बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया कि हम बिना इन चीजों के जी सकते हैं कोई अब सुख लेने वाली बात नहीं है सुख लेने का उद्देश्य नहीं है अब हम मिल गया तो खा लिया नहीं मिला तो ना सही उसके बिना भी आराम से जी सकते हैं ऐसा अभ्यास किया तीसरा हाँ ऐसे कभी बादाम छोड़ दिया कभी घी छोड़ दिया कभी दूध छोड़ दिया कभी मिठाई छोड़ दी एक बार कुछ पेट खराब सा हो गया खाते खाते पेट बिगड़ जाता है तो वैद्य जी से सलाह ली क्या करें बोले आपको थोड़ा पाचन की दिक्कत है और आप ये चीनी बंद करो चीनी खाना बंद करो एक महीने के लिए चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाना हमने कहा ठीक है हम तो पहले ही अभ्यास करते रहते हैं हमें <laughs> कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हम बंद कर देंगे तो हमने बंद कर दिया एक महीने तक कोई चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई तो हमने कहा शरीर में मीठे की पूर्ति के लिए क्या करें बोले गुड़ खा लो शक्कर खा लो गुड़ की शक्कर आती थी उधर उत्तर भारत में गुड़ की शक्कर ले लो और बूरा ले लो पर ये चीनी मत खा लो हमने कहा ठीक है एक महीने तक चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई बहुत अच्छा रहा फिर हमारा उत्साह बढ़ा हमने कहा इसको दो महीने चलाओ उसको दो महीने चलाया दो महीने तक कोई मिठाई नहीं खाई फिर बहुत अच्छा लगा फिर उसको एक एक महीना बढ़ाते गए और मुझे अच्छी तरह याद है आठ महीने तक कोई चीनी नहीं खाई चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई अब हम जहां भी जाते घरों में वो कहते लो गुरु जी मिठाई खाओ हम कहते हम नहीं खाते अरे आप मिठाई नहीं खाते कैसे आदमी है <laughs> लोगों को आश्चर्य होता था कि आप मिठाई नहीं खाते लोग मिठाई के पीछे तरसते हैं और आप मिठाई नहीं खाते डायबिटीज हाँ? है क्या हाँ नहीं नहीं हमने कहा डायबिटीज कुछ नहीं है डायबिटीज <laughs> कुछ नहीं है तो पूछेंगे लोग हाँ आज भी नहीं है डायबिटीज ये तो तीस साल पुरानी बात कर रहा हूँ आज भी डायबिटीज नहीं है तो आज जब जाते हैं घरों में तो लोग कहते हैं गुरु जी दूध पियेंगे हाँ हाँ पियेंगे तो दूध में शक्कर डालोगे नहीं डालो हाँ हाँ जरूर डालो हमें डायबिटीज नहीं है <laughs> तो वो तो तीस साल पुरानी बात है आज भी इतनी उम्र हो गई अभी भी डायबिटीज नहीं है भगवान की बहुत कृपा है तो इस तरह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहा और ऐसे ऐसे करके छोड़ते रहे तो इससे बहुत अच्छा नियंत्रण हो गया सुख लेने की वृत्ति कम होती गई तीसरा एक उपाय बताया गुरु जी ने कि भोजन खाओ घी दूध मक्खन मलाई मिठाई सब खाओ मन से उसको ब्रेक लगाओ कि इस चीज का सुख नहीं लेना मन से ब्रेक लगाओ उन्होंने समझाया देखो एक रसना इंद्रिय एक मन है दोनों अलग अलग चीजें हैं पांच इंद्रिया है ना आंख नाक कान रसना और त्वचा तो इंद्रियों के कार्य अलग हैं मन का कार्य अलग है इंद्रियों का कार्य है अपने विषयों का ज्ञान कराना इनका नाम है ज्ञान इंद्रिय तो रसना इंद्रिय का क्या काम है रस का ज्ञान कराना रस विषय का ग्रहण करती है उसका ज्ञान कराती है नेत्र का है रूप का ज्ञान कराना और नासिका का है गंध का ज्ञान कराना तो ये तो इंद्रिया तो अपना काम करेंगी इनको अपना काम करने दो सुख लेना ये मन से होता है इंद्रियों का काम अलग है मन का काम अलग है इंद्रियों को अपना काम करने दो मन के काम को ब्रेक लगाओ सुख लेना ये मन से होता है कैसे होता है तो उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाता है गुलाब जामुन खाता है तो रसना इंद्रिय से जब संपर्क होता है उसका तो रसना कहती है मीठा है बढ़िया है स्वादिष्ट है अच्छा है तो रसना इंद्रिय तो मीठे रस का ज्ञान कराती है आगे फिर जो मन है वो कहता वाह मजा आ गया बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा है आज छह महीने बाद मिला ऐसा बढ़िया तो ये जो मन का काम है ये है ये मन का जो काम है इससे व्यक्ति सुख ले रहा है तो गुरु जी ने कहा ये मन से ये बात दोहरा बंद करो खा लो रसना तो बताएगी मीठा है नींबू शरबत पियेंगे तो रसना बताएगी ये खट्टा है थोड़ा चीनी भी डाल रखी है मिठास भी है खट्टा भी है मीठा भी है इंद्री अपना काम करेगी वो करने दो मन से उसको रिपीट मत करो वाह बहुत अच्छा है मजा आ गया ये मत बोलो तो क्या है सुख लेने को ब्रेक लग जाएगी और ये ब्रेक एक दिन में नहीं लगेगी हाँ जैसे रेलगाड़ी चलती है ना तो रेलगाड़ी जब रुकनी होती है तो दो किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाते हैं <laughs> तब जाके वो इतनी दूर जाके रुकती है उसमें खूब प्रेशर होता है मोमेंटम होता है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो वेव कम होता है और दो किलोमीटर बाद जाके प्लेटफॉर्म पे रुकती है गाड़ी ऐसे ही ये जो भोगों का जो प्रेशर है मन में जो संस्कारों का प्रेशर है दबाव है कितने वर्षों का है कितने जन्मों का है इतने जन्मों से आदत पड़ी है सुख लेने की ये इतनी आदत कोई एक दिन में थोड़ी छूटेगी इसको लंबा समय लगेगा करो मेहनत और रोज संकल्प करो सुबह उठते ही संकल्प करो कि भोजन अच्छा खाएंगे शरीर रक्षा के लिए खाएंगे शरीर की पुष्टि के लिए खाएंगे स्वस्थ रहने के लिए खाएंगे विद्या पढ़ने के लिए खाएंगे परोपकार समाज सेवा के लिए खाएंगे परमात्मा का ध्यान करने के लिए खाएंगे पर सुख नहीं लेंगे सुबह उठते ही संकल्प करो रोज करो और जब खाने की टेबल पर पहुंचो तब तुरंत सावधान हो जाओ फिर दोहराओ कि भोजन खाएंगे और सुख नहीं लेंगे खाते समय भी सावधान रहो बस खाते जाओ मन से सुख मत लो वाह बहुत अच्छा है ये मत खाओ ठीक है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है खा रहे ऐसे सामान्य रूप से खाओ तो ये उपाय बताया फिर इसका अभ्यास किया कम से कम पंद्रह साल पंद्रह वर्ष तक लगातार मेहनत की हर रोज पूरी ईमानदारी के साथ ये नहीं कि दूसरों को दिखा कर रहे हैं कि हाँ साहब हम तो सुख नहीं ले रहे और अंदर अंदर लेते रहे <laughs> ऐसा नाटक नहीं हम जैसा बोलते थे ऐसा करते भी थे हम कहते थे भाई हम योगाभ्यास कर रहे हैं हम मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं इनका कंट्रोल कर रहे हैं और ये उसकी विधि है हम खाते हैं और अंदर से ब्रेक लगाते हैं सुख नहीं लेना पूरी ईमानदारी से अभ्यास किया तो करीब करीब पंद्रह वर्ष के बाद जाके हमको ये स्थिति हाथ में आई कि अब बिना सुख लिए खा सकते हैं और ये अभ्यास शुरू किया आज तीस बत्तीस वर्ष हो गए तो समझ लीजिए पिछले पंद्रह साल से अब ये ठीक चल रही है गाड़ी खा लेते हैं सुख नहीं लेते तो लोग बड़े बड़े चतुर होते हैं हम्म, परीक्षा लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा गुरु जी कैसे पता चलेगा आप सुख लेते हैं कि नहीं लेते हैं <laughs> हमें कैसे पता चले आप सुख लेते हैं कि नहीं लेते हैं हाँ, ये तो अंदर की बात है मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे परीक्षा कैसे होती है वो भी बताएंगे और उस कसौटी से आप अपनी भी परीक्षा कर सकते हैं हमारी भी कर सकते हैं सबकी कर सकते हैं तो हमने कहा कि परीक्षा ऐसे होती है कि यदि आप किसी वस्तु का सुख लेते हैं और वो वस्तु आपको खाने को नहीं मिली तो आपको दुख होगा ये अभी आने वाला है संस्कार दुख में आप उसका सुख ले लेकर खाते हैं और एक दिन आपको वो खाने को नहीं मिली तो आपको दुख होगा अगर दुख होता है तो समझ लो आप सुख लेते हैं ऐसे पता चल जाएगा और मिल गई तो खा ली नहीं मिली तो ना सही कोई दुख नहीं तो इसका अर्थ है आप सुख नहीं ले रहे बस जीने के लिए खा रहे और बदल बदल के चीजें खानी चाहिए ताकि शरीर को सब तरह के पदार्थ मिलते रहे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोटीन्स भी विटामिन भी सब चीजें मिलती रहें ऐसे बदल बदल के चीजें खाते रहो दाल में कुछ और मिलेगा सब्जियों में कुछ और मिलेगा फलों में कुछ और मिलेगा ऐसे सब चीजें बदल बदल के खाओ स्वास्थ्य रक्षा के लिए सुख लेने के लिए नहीं <clears throat> और असली परीक्षा तो तब होगी जब आपको खीर खाने में शौक है बड़ा सुख लेकर खाते हैं आप बड़ी फेवरेट आइटम है आपकी खीर पिस्ता बादाम डाल के इलायची केसर डाल के बढ़िया मीठी बनी हुई गर्मा गर्म और आपको थाली में परोस दी लो जी खाओ और आप जैसे ही खाने लगे फिर उठा के छीन कर ले गए तब देखो दुख हुआ कि नहीं <laughs> तब अंतिम परीक्षा हो जाएगी थाली में रख के भी फिर उठा के ले ले छीन जाए तब पता चलेगा दुख हुआ कि नहीं अगर उस दिन भी नहीं हुआ तो समझ लो कि आप सुख नहीं लेते मक्खी गिर गई हाँ मक्खी गिर गई <laughs> बढ़िया अच्छी खीर बनी थी और उसी समय एक मक्खी गिर गई अब छोड़नी पड़ेगी अब देखो दुख हुआ कि नहीं हुआ अगर दुख हुआ तो समझ लो आप सुख लेते हैं ये कसौटी है ऐसे आप अपनी भी परीक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी तो ऐसे प्रयास करते करते अभ्यास करते करते हमको ये बात समझ में आई कि हाँ ऐसा हो सकता है बिना सुख लिए आदमी खा सकता है बिना सुख लिए कार में बैठ सकता है बिना सुख लिए एयर कंडीशन का लाभ ले सकता है बिना सुख लिए हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है वो समाज सेवा के लिए कर रहा है परोपकार के लिए कर रहा है विद्या पढ़ाने के लिए कर रहा है समय कम है काम बहुत अधिक है इसलिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है ये सारी मशीनें इसीलिए तो आपने मंगवाई कि समय कम है और काम बहुत है चलो मशीन लाओ मिक्सचर लाओ फटाफट काम करो कुकर लाओ जल्दी जल्दी खाना बनाओ बहुत सारे लोग हैं टाइम कम है ऑफिस जाना है जॉब पर जाना है तो इस तरह मशीनों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है पर वो सुख के लिए नहीं होना चाहिए <clears throat> तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सुख नहीं लेगा वो तीन दुखों से तो बच जाएगा वो पहले से दिख रहा उसको कि सुख लिया तो फंस जाऊंगा इसमें राग होगा आसक्ति बढ़ेगी मन में इच्छा फिर भी कुल बुलाती रहेगी और वो तृप्ति तो होनी नहीं तो फिर मैं ये झंझट क्यों मुसीबत मोल लू इसका सुख लेना ही नहीं और थोड़े दिनों में ये कुल बुलाट खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारी वो आदत हमने ब्रेक लगा दी तोड़ तोड़ दी आदत सुख लेने की आदत तोड़ दी तो कुछ दिनों के बाद वो इच्छा उठनी ही बंद हो जाएगी सुख के लिए इच्छा उठनी ही बंद हो जाएगी तब बड़े आनंद से जियेंगे बड़े मौज मस्ती से जियेंगे कोई इच्छा हमको परेशान नहीं करेगी और हम इन परिणाम ताप आदि दुखों से छूट जाएंगे तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे विचार करे ऐसे उपायों का अनुष्ठान करे प्रयोग करे अभ्यास करे तो इन तीन दुखों से तो बच सकता है चौथा नहीं छोड़ेगा तो ये परिणाम दुख तो आगे समझ में आगे चलिए अथ का अथ का ताप दुखता ताप दुखता तो कहते हैं अच्छा तो फिर ये बताइए ताप दुख क्या चीज है इसको समझाएंगे सर्वस्य सर्वस्य द्वेशानुविद्ध चेतन चेतन अचेतन अचेतन साधन साधन अधीन अधीन तापानुभव तापानुभव इति इति भाष्यकार व्यास जी महाराज कहते हैं कि सर्वस्य सब प्राणियों की हम्म। ये अनुभूति होती है ताप अनुभव इति ताप का अनुभव दुख का अनुभव सबको होता है जीवन में और जब दुख का अनुभव होता है तो फिर द्वेष भी साथ होता है उसके दुख का ही द्वेष फिर द्वेष भी होगा तो दुख का अनुभव होता है और द्वेष भी होता है चेतन अचेतन साधनों के अधीन इन साधनों के माध्यम से कहीं चेतनों से दुख मिलता है कहीं जड़ वस्तुओं से भी दुख मिलता है खाना बनाते समय गैस खत्म हो गई देखना गुस्सा आएगा टेलीफोन करते करते बात करते करते बिगड़ गया देखना बहुत गुस्सा आएगा टेलीफोन पर इसको इसी समय बिगड़ना था इस गैस को आज ही खत्म होना था खूब गुस्सा आएगा सब्जी काटते काटते चाकू से उंगली कट गई देखना चाकू पे गुस्सा आएगा गलती हमारी फिर भी गुस्सा चाकू पे लाइट चले गए लाइट चली गई देखो काम कर रहे थे अच्छा लगा पक्का नहीं है तो जड़ वस्तुओं पे भी गुस्सा आता है उनसे दुख मिलता है हम्म। और चेतनों पे भी गुस्सा आता है जब बच्चे आपकी बात नहीं मानते तब बहुत गुस्सा आता है रात को सोने नहीं देते शोर मचाते हैं आपको तेज नींद आ रही है और वो सोने नहीं देते फिर गुस्सा आता है कोई पड़ोसी धोखा दे जाता है पार्टनर धोखा देता है व्यापार में तब कितना दुख होता है तो इस प्रकार से चेतनों से जड़ों से दुख का अनुभव होता रहता है हर एक व्यक्ति को और वो द्वेष के साथ फिर युक्त हो जाता है तत्रास्ति तत्रास्ति द्वेषज द्वेषज कर्माशय कर्माशय तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर जब दुख होता है तो द्वेष भी होता है द्वेष होता है तो द्वेष से उत्पन्न कर्माशय भी होता है फिर वो गुस्से में आकर उससे बदला लेने की सोचता है अच्छा मैं भी देख लूंगा इसको छोड़ूंगा नहीं बच्चों मेरा नंबर आने दे देखते जो दिन में तारे दिखाऊंगा ऐसे ऐसे वो सारी योजना बनाता है ये सारा द्वेषण करना है फिर उसके विरुद्ध योजना बनाता है उल्टे सीधे काम करता है उसका काम बिगाड़ता है ये सब चलता रहता है सुख साधना नीच सुख साधना नीच प्रार्थयमान प्रार्थयमान कायेन कायेन वाचा वाचा मनसाच मनसाच परिस्पंदते परिस्पंदते तो हर व्यक्ति सुख साधनों की प्रार्थना करता हुआ मन में इच्छा करता हुआ कि मुझे सुख साधन मिले बढ़िया गाड़ी मिले बढ़िया मकान मिले फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन मिले खूब बैंक बैलेंस अच्छा हो कुछ दो चार मकान जमीन भी खरीद के रख दू कल को काम आएंगे भाव बढ़ते ही रहते हैं जमीन मकान के प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते रहते हैं कल जरूरत पड़ेगी पैसे की तो इसको बेच बाज के अपना काम करेंगे ऐसे ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी इच्छाएं करता रहता है धन आदि की तो मन में सुख साधनों की इच्छा करता हुआ कार्य शरीर से वाचा वाणी से मनसा मन से मन वाणी और शरीर से वो परिस्पंदते चेष्टाएं करता रहता है मतलब क्रियाएं करता रहता है अर्थात कर्म करता रहता है मन वाणी शरीर से वो कर्म करता रहता है <clears throat> ततः ततः परम परम अनुग्रहणाती अनुगृहणाति उपहन्ति च उपहन्ति च इति इति परानुग्रह परानुग्रह पीडाभ्याम पीडाभ्याम धर्माधर्मौ तो वो जो मन वाणी शरीर से कर्म करता रहता है अच्छे बुरे राग द्वेष के कारण उससे क्या होता है तथा उससे कर्म से परम दूसरे व्यक्ति को किसी को भी किसी को तो थी उस पर अनुग्रह करता है कृपा करता है उसको सुख देता है किसी किसी को सुख देता है मनवाणी शरीर से और उपहंती किसी को दुख देता है जिसने धोखा दिया उससे झगड़ा करेगा उससे बदला लेगा तो ऐसे किसी को सुख देता है किसी को दुख देता है इस प्रकार से पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम दूसरों को सुख और दुख देते हुए सुख दुख देते हुए इस प्रकार से कर्मों से धर्माधर्मो होती धर्म और अधर्म का संग्रह करता जाता है मतलब पुण्य और पाप का संग्रह करता जाता है अपने परिवार वालों को सुख देता है दूसरों को दुख देता है तो परिवार वालों की रक्षा करता है उसमें पुण्य मिलता है और जो शत्रु है उनको दुख देता है उससे पाप पाप लगता है पाप जमा होता रहता है ऐसे पाप पुण्य सब जमा होता रहता है सकर्माशया सकर्माशय लोभा लोभा मोहाच मोहाच इति एषा इति एषा ताप दुखता ताप दुखता उच्यते उच्यते तो ये जो द्वेष के कारण कर्म करता है कि इसने मेरा नुकसान किया इसको छोड़ूंगा नहीं इससे बदला लूंगा और इसने मेरा एक लाख का नुकसान किया इसका मैं पांच लाख का नुकसान करूंगा ऐसे ऐसे वो द्वेष के कारण सारी योजनाएं बनाता है और सारे ऐसे काम करता है उसको लोगों में झूठे आरोप लगा लगा के बदनाम करता है ऐसे ऐसे उसकी गुडविल खराब करता है व्यक्ति ये सारा द्वेषकृत कर्माशय है द्वेषज कर्माशय तो वो जीवन में ऐसे कर्म करता ही रहता है व्यक्ति जिसको राग होगा वो द्वेष भी होगा वो सुख लेगा तो जब उसका कोई सुख छीनेगा तो उसको गुस्सा आएगा झगड़ा करेगा द्वेष करेगा अन्याय करेगा जो भी करेगा वो सारा उसका पाप कर्म जमा होता जाएगा तो इसका नाम है ताप दुख तो ये भाव ये हुआ कि जिस चीज से हम सुख लेते हैं यदि कोई व्यक्ति हमारी उस चीज को छीनेगा तोड़ फोड़ डालेगा नष्ट कर देगा खराब कर देगा तो हमारा सुख तो गया ना तो फिर गुस्सा आएगा तो वो हमारी वस्तु को छीन लेगा हमारा सुख छीन लेगा इस बात से उसको डर लगता है भय लगता है कोई छीन ना ले कोई बिगाड़ ना दे कोई नष्ट ना कर दे अगर कर दिया तो मैं तो फिर रह जाऊंगा खाली मेरा सुख तो गया मैं कैसे जीऊंगा उस सुख के बिना कैसे जीवंगा तो इस प्रकार से जो सुख छीन लिए जाने का भय सताता है ये ताप दुख है और छीन भी ले जाए सचमुच में वास्तव में छीन ही ले तब भी उसको दुख होता है ये सारा ताप दुख है मतलब ताप दुख तो ऐसा है कि छीन लो तब भी सताएगा नहीं छीनेगा तब भी सताएगा छीनेगा नहीं बस संभावना मात्र से उसको डर लगता है इससे छुटकारा कैसे पाएगा इसके छुटकारा पाने का रास्ता है कि आप सुख लेना छोड़ दो तो ये ताप तो दुख परेशान नहीं करेगा वस्तु मिल जाएगी तो लाभ ले लेंगे नहीं मिलेगी तो ना से तो आपको खीर पूरी हलवा मिठाई खाने को मिलती है आप उसमें सुख लेते हैं अगर तो मिल गई तो आप सुख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और नहीं मिली तो आपको फिर दुख होगा तो आप यदि सुख लेना ही छोड़ दें तो आपको ये ताप तो दुख नहीं सताएगा आपको यूं डर नहीं लगेगा कि मैंने आज चार रसगुल्ले मंगा के तो रखे हैं कभी ऐसा ना हो बीच में कोई खा जाए हाँ कोई मेहमान आ जाए और उसको खिला दिया जाए और मैं तो रह गया <laughs> मेरा सुख तो गया फिर ये डर आपको नहीं सताएगा यदि आप सुख नहीं लेते हैं तो यदि सुख लेते हैं तो ये डर सताएगा शाम को चार बजे रसगुल्ले ला के रख दिए और रात को सोचा आठ बजे खाएंगे डिनर के साथ तो चार घंटे तक आपको ये ताप दुख परेशान करेगा कोई पीछे से खा ना जाए कोई छिपकली ना घुस जाए उसमें <laughs> कोई मेहमान ना खा जाए कोई बच्चे ना बिगाड़ दें ऐसे ऐसे अगर आप सुख नहीं लेते हैं तो आपको ये नहीं सताएगा आप क्या सोचेंगे भाई ठीक है रखेंगे स्वास्थ्य के लिए खाएंगे मिल जाएंगे तो खा लेंगे और खा गया तो खा गया ना सही कोई बात नहीं जो बचेगा दाल रोटी मिलेगी वो खा लेंगे सब्जी मिलेगी वो खा लेंगे खिचड़ी मिली तो वो खा लेंगे कुछ तो मिलेगा पेट भरने को जो मिलेगा वो खा लेंगे अपने को सुख तो लेना ही नहीं तो आपको ताप दुख नहीं सताएगा उससे आप बच सकते हैं परिणाम दुख नहीं सताएगा आपने सुख लेने का उद्देश्य बनाया ही नहीं तो आपको इच्छा क्यों सताएगी कि सुख नहीं मिला इच्छा पूरी नहीं हुई सताएगा ही नहीं तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं तो इस पंक्ति का अर्थ था सकर्माशय वो जो कर्माशय है उस व्यक्ति के जीवन में लोभात लोभ के कारण से भी होता है मोहाच अविद्या से अज्ञानता से भी होता है सब तरह के कर्म उसके जीवन में होते रहते हैं जैसे बहुत से लोग क्या सोचते हैं मोह से कर्म कैसे होते हैं अविद्या से कई लोग जाते हैं वो काली माई कलकत्ते वाली के मंदिर में कलकत्ता में काली माई का मंदिर है काली माता का तो वहां क्या करते हैं किसी बच्चे का मुंडन संस्कार कराना तो वहां एक बकरे की बलि चढ़ाएंगे बच्चे का मुंडन करेंगे बकरे की बलि चढ़ाएंगे और क्या सोचेंगे ये बलि चढ़ाने से ये काली माई देवी बहुत प्रसन्न होगी अब ये हिंसा कर रहे हैं बेचारे को मार रहे हैं ये अविद्या से मार रहे हैं अज्ञानता से मार रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि इस बकरे को मारने से देवी प्रसन्न नहीं होगी वो नहीं समझ रहे तो अविद्या के कारण ऐसे हिंसा करते तो ऐसे मोहप्रीत कर्माशय भी होता रहता और लोभ से तो होता ही ये चोरी डकैती लूटमार रिश्वत ये सारी लोभ के कारण ही है इतने पाप हो रहे हैं सारे तो ये सब पाप चलते रहते हैं फिर इसका परिणाम आगे भोगना पड़ेगा कितने जन्मों तक इसका दंड मिलेगा तो यदि हमने सुख लिया तो सुख के चक्कर में रिश्वत भी लेंगे हेराफेरी भी करेंगे सब गड़बड़ करेंगे और फिर इसके पाप करते जाएंगे फिर आगे दूर तक दंड भोगना पड़ेगा तो ये सारा ताप तो दुख का है दूर तक विस्तार है इसका इसलिए सुख मत लो बस जीने के लिए खा लो जीने के लिए साधन बहुत थोड़े से चाहिए थोड़े से साधनों में आदमी जी के अपनी रक्षा कर सकता है बस इतना ही कमाओ मेहनत से और ईमानदारी से अपना जीवन चला लो लोभ मत करो फालतू जमा मत करो छीना झपटी मत करो अन्याय मत करो शोषण मत करो लूटमार मत करो दूसरे का अधिकार मत छीनो तो हम बहुत सा पाप से बच जाएंगे ऐसे करना चाहिए का पुनः का पुनः संस्कार दुखता संस्कार दुखता तो अब कहते हैं अच्छा ये बताइए संस्कार दुखता क्या चीज है संस्कार दुख क्या है इसको समझाइए तो व्यास जी समझा रहे हैं सुखानुभवात सुखानुभवात सुख संस्कार आशय सुख संस्कार आशय दुखानुभवात दुखानुभवात अपि अपि दुख संस्कार आशय दुख संस्कार आशय इति सुख का अनुभव करने से सुख के संस्कार बनेंगे एक बार रसगुल्ला खाया उसका सुख लिया उसके संस्कार बन जाएंगे सुख लिया कैसे लिया वाह मजा आ गया बहुत बढ़िया था रसगुल्ला बहुत दिनों हाँ। बाद मिला बहुत बढ़िया ठीक है ऐसे आपने सुख लिया तो मन के ऊपर ये छाप लग जाएगी कि रसगुल्ला बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया ये है संस्कार अब ये संस्कार क्या करेगा एक आठ दिन में दस दिन में दोबारा इच्छा पैदा करेगा आज फिर रसगुल्ले मंगाओ फिर उसका सुख लेंगे अब दूसरी बार भी मंगा लिए दूसरी बार भी सुख ले लिया फिर सुख ले लिया अरे वाह बहुत अच्छे रसगुल्ले थे मजा आ गया अब दो संस्कार हो गए तो दस बार रसगुल्ले खाए दस संस्कार हो गए हर बार सुख लेते जाते हैं और संस्कार बनते जाते हैं तो कह रहे हैं सुख अनुभवात सुख संस्कार आशय हो ऐसे बार बार सुख लेते रहेंगे तो सुख का संस्कारों का भंडार बनता जाएगा संस्कार खूब जमा होते जाएंगे बीस बार सुख लिया तो बीस संस्कार जमा हो गए इसी तरह से दुख अनुभवात दुख संस्कार आशय किसी व्यक्ति ने दुख दिया और हम उससे दुखी हो गए परेशान हो गए तो उस पर गुस्सा आएगा उस गुस्से के संस्कार जमा हो जाएंगे दुख वाले उससे द्वेष हो जाएगा कि बहुत बेकार है नालायक इसको देख लूंगा <laughs> फिर उसने परेशान किया दस दिन बाद फिर दूसरी बार गुस्सा आएगा फिर और संस्कार जमा होंगे कभी कुत्ता परेशान करता है उसका दुख का संस्कार हुआ वो जमा हो गया कोई आदमी तंग करता है उससे दुख होगा उसका संस्कार बन गया ऐसे जितनी भी चीजों से हम दुखी होते रहेंगे जड़ हो या चेतन गैस खत्म हो गई टेलीफोन बिगड़ गया टेलीविजन बिगड़ गया मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई अब बात करनी थी जरूरी और बैटरी डाउन हो गई बात नहीं कर सकते तो दुख होगा तो जितना भी हम दुख भोगते जाएंगे उसके सारे संस्कार इकट्ठे होते जाएंगे फिर ये संस्कार क्या करेंगे आगे बढ़िए एवं कर्मभ्योग एवं कर्मभ्यो विपाके विपाके अनुभूयमाने अनुभूयमाने सुखे सुखे दुखे व दुखे व पुनः पुनः कर्माशय कर्माशय प्रचय प्रचय तो इस प्रकार से दुख भोगने से दुख के संस्कार बनेंगे सुख भोगने से सुख के संस्कार बनेंगे और ये संस्कार फिर हमको उन उन कर्मों में फिर से प्रेरित करेंगे सुख के संस्कार हमको दोबारा सुख लेने के लिए प्रेरित करेंगे दुख वाले संस्कार दुख वाले द्वेष वाले कर्म करने को प्रेरित करेंगे और ऐसे हम बार बार रागज और द्वेषज कर्म करते जाएंगे और फिर उसका फल सुख दुख मिलता रहेगा फिर सुख दुख भोगेंगे फिर संस्कार बनेंगे फिर नए कर्म होंगे फिर सुख दुख भोगेंगे फिर संस्कार बनेंगे ये चक्कर चलता रहेगा अच्छे बुरे कर्म दो बात अच्छे कर्म बुरे कर्म दो चीज हो गई इनका फल सुख और दुख अच्छे कर्म का फल सुख बुरे कर्म का फल दुख फिर इन सुख दुख को भोगने से संस्कार सुख भोगा तो सुख का संस्कार दुख भोगा तो दुख का संस्कार तो ये छह चीजों का चक्कर चलता रहेगा कर्म फल संस्कार तो फिर बार बार कर्म करते जाएंगे बार बार संस्कार बनते जाएंगे बार बार फल भोगेंगे तो कई जन्म तक ये चक्कर चलता रहेगा और दुखों से छूट नहीं पाएंगे इसलिए संस्कार मत बनाओ संस्कार को ब्रेक लगाओ वो विधि बताई थी गुरु जी ने कि मन से सुख नहीं लेना और कोई परेशान करे तो दुखी भी नहीं होना दुख का भी संस्कार नहीं बनाना सुख का भी नहीं बनाना दोनों को ब्रेक लगाना तो ये संस्कार नहीं बनेंगे तो हम उस तरह के राग द्वेष वाले कर्म भी नहीं करेंगे तो राग द्वेष वाले कर्मों को ब्रेक लगानी है उसका तरीका यही है कि संस्कार मत बनने दीजिए अगर <clears throat> वस्तु अच्छी है सुखदायक है तो इस ढंग से प्रयोग कीजिए बस जीने के लिए खानी है समाज सेवा के लिए इसका प्रयोग करना है सुख नहीं लेना तो जब सुख नहीं लेना तो उसका संस्कार नहीं पड़ेगा और आप संस्कार को रोक देंगे तो फिर रागज कर्माशय भी नहीं होगा उससे बच गए और जब कोई दुख देगा परेशान करेगा तब उससे दुखी नहीं होना उसके दुख को ब्रेक लगाओ तो दुख का संस्कार नहीं पड़ेगा दुखी कैसे ना हो उसका उपाय क्या उसका उपाय यह है कि छोटा मोटा दुख आए तो बोलो कोई बात नहीं संसार में जन्म क्यों लिया है अब लिया है तो कुछ तो भोगना ही पड़ेगा संसार में जन्म लिया है कुछ तो दुख आएगा भोगो तैयारी करो आने दो दुख देख लेंगे उससे टक्कर लेंगे घबराएंगे नहीं उससे तैयारी करो तो घबराएंगे नहीं आसानी से पार हो जाएगा ठीक है ना हाँ जैसे ठंडी का सीजन आ रहा है तो ठंड पड़ेगी तो परेशानी तो होगी अब जो पहले से तैयारी करता है वो कहता है आने दो ठंडी हो देख लेंगे कुछ मालिश वालिश करेंगे कुछ गर्म आइटम खाएंगे कोई घी दूध मक्खन मलाई खाएंगे पिस्ता बादाम खाएंगे काजू खाएंगे खूब गर्मी पैदा करेंगे शहद खाएंगे और जो है इस ठंडी से मुकाबला करेंगे जो ऐसी तैयारी करता है उसको ठंडी कम परेशान करेगी और जो इतनी तैयारी नहीं करता वो सारा सीजन दुखी रहेगा बहुत ठंड पड़ रही है भाई क्या करें अरे खिड़की बंद करो भाई ठंड ठंड बहुत हो रही है अरे कंबल लाओ ना अरे रजाई लाओ ना क्या मुसीबत है इतनी ठंड पड़ती है <laughs> वो दुखी होता रहेगा सारे सीजन तो इस प्रकार से तैयारी करो संस्कारों को रोको संस्कार दुख से बच जाएंगे तो जो दुख आता है सामान्य दुख आता है तो बोलो कोई बात नहीं तो आप दुख को रोक देंगे हम्म। उसका संस्कार नहीं पड़ेगा और बड़ा दुख आ गया और उसने जानबूझ कर दिया है दुख योजनाबद्ध होते हैं ना ऐसे खराब खराब खोपड़ी वाले जानबूझ के तंग करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जब पता चला कि जानबूझ के परेशान करता है तब अंदर से संकल्प करो ये भले परेशान करता है पर मुझे दुखी नहीं होना है मैं अपनी सुरक्षा पूरी करूंगा उसके बाह्य आक्रमण से बचने का पूरा प्रबंध करें पूरी सुरक्षा करें ये कहां कहां से हमला करेगा उससे पहले से प्रोटेक्शन तैयार रखें कुछ लोगों को शिकायत करें भाई इसको रोको ये तंग करता है ये हमको परेशान करता है इसको ब्रेक लगाओ वो भी करें पर मन में दुखी नहीं हो मन में तैयारी रखें कि ये परेशान करेगा और मुझे दुखी <coughs> ये दुखी करेगा और मुझे दुखी नहीं होना और फिर ये जानबूझ के कर रहा है इसको सहना कठिन है अनजाने में कोई दुख दे तो सहन हो जाता है भाई चलो कोई बात नहीं हर एक आदमी से भूल चूक हो जाती है अनजाने में सबसे होती है गलती इससे भी हो गई चलो वो तो सहन आसान है पर ये तो पढ़ा लिखा आदमी जानबूझ के तंग करता है इसको सहना कठिन है तब भी दुखी नहीं होना तब क्या सोचना ईश्वर न्याय करेगा बोलिए ईश्वर न्याय करेगा बस ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए आप दुखी नहीं होंगे और बाह्य सुरक्षा पूरी रखें वो आक्रमण करेगा उससे अपनी शारीरिक सुरक्षा पूरी रखें और हमारा सामान नष्ट करेगा उससे भी अपनी सुरक्षा पूरी रखें चौकीदार रखें ताले लगाएं सारी सुरक्षा करें हमारा सामान तोड़ फोड़ नहीं दे चोरी न करके ले जाए वो पूरी रखें और मन में ये सोच के रखें कि ये गड़बड़ करता है ईश्वर इसको देख लेगा इसको ईश्वर के कंट्रोल में डाल दो उसके न्यायालय में छोड़ दो तम वो जम्भे दद ईश्वर की कोर्ट में उसको डाल दो वो अपने आप दंड दे देगा और मुझे बुद्धिमत्ता से काम लेना है इससे बच के रहना अपनी सावधानी से सुरक्षा रखनी है मेरी शक्ति कम पड़ेगी तो चार आदमी इकट्ठे कर लूंगा उनकी सहायता लूंगा और उसको ब्रेक लगा दूंगा द्वेष नहीं करूंगा झगड़ा नहीं करूंगा पर अपनी रक्षा जरूर करूंगा इतना अधिकार भारत सरकार ने भी दे रखा है ईश्वर ने भी दे रखा है दोनों ने कह रखा है अपनी रक्षा स्वयं करो अपनी रक्षा करने का सबको अधिकार है तो दोनों तरफ से हमें भारत सरकार से भी ईश्वर से भी दोनों ओर से छूट है अपनी रक्षा सब पूरी करो उसमें कोई आपत्ति नहीं इस तरह से हम दुखी नहीं होंगे और दुख के संस्कारों को ब्रेक लगा देंगे तो फिर द्वेष नहीं बनेगा और द्वेषित कर्माशय भी नहीं होगा बच गए छूट गए हाँ खुले माता जी शारीरिक ताप समझो किसी का डायबिटीज है पैर काट दिया जाए तो हम्म। दुख तो होगा ही ना उसको उसको भी हम आसानी से सह लेंगे अभी बताया ना कि ये तो एक पाव काटा है और आ, आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल देते हैं वो चार पांव से चलने लगता है यहां दो पांव से चलता है वहां चार से चलता है मकड़ी बना दिया तो आठ पांव से चलता है वो जैसी बॉडी मिले उसमें सेट हो जाता है एडजस्ट कर लेता है और वो अपना माइंड मेकअप कर लेता है अपना मन बना लेता है मुझे ऐसे ही जीना है एक पांव कट गया कोई बात नहीं मैं एक ही पांव से जीऊंगा थोड़ा नकली पांव लगाऊंगा थोड़ा वो उसका लकड़ी का सहारा ले लूंगा मुझे ऐसे ही जीना वो अपना मानसिकता ऐसी बना लेगा वो बिना दुखी हुआ जी लेगा मेरे पास ऐसा वीडियो है जिसमें ऐसे ऐसे लोगों के फोटो हैं जो खुश होकर जी रहे जिनके दोनों पाँव नहीं और दोनों हाथ भी नहीं बताइए चारों चीजें गायब हैं दोनों हाथ भी कटे हुए हैं दोनों पाँव भी कटे हुए हैं यहाँ कंधे से लेकर बस कूल्हे तक इतना ही शरीर है वो इतने वो स्विमिंग भी करते हैं स्विमिंग करने जाते हैं जॉब पर जाते हैं नौकरी करते हैं खाते पीते हैं मस्त रहते हैं खुश रहते हैं बनाते हैं है? खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं कैसे बनाते यही तो वो दिखाऊंगा आपको वीडियो हाँ, तो तो <laughs> मैं आपको भेज दूंगा ईमेल में बढ़िया वीडियो है वो आप देखिएगा बड़ा उत्साह मिलता है फेसबुक पे डाल रखा मैंने तो इतना आप देखिएगा आपको पता चलेगा वो ब्रश कैसे करते हैं है? नहाते कैसे हैं स्विमिंग पूल में कैसे स्विमिंग करते हैं बाहर कैसे निकल आते हैं क्या कमाल है वो भी कितने उत्साह से जी रहे हैं तो देखो वो परेशान नहीं है उन्होंने अपने मन को मना लिया है मन को समझा लिया है हमको ऐसे ही जीना है हमारे पास इतना ही साधन है उसी में खुश है तो पांव कट गया डायबिटीज के कारण तो भी कोई चिंता नहीं है अपना मन बनाओ मन के हारे हार है मन के जीते जीत जो मन से हार गया वो जी वो हार गया उसके चार पांव हाथ पांव सब सलामत है तो भी वो बेचारा दुखी है निरुत्साहित है परेशान है वो ठीक से नहीं जी पाएगा और जिसके चारों ही नहीं हाथ भी नहीं और पांव भी नहीं तो भी वो खुश होकर जी रहा है बस मन से सोचने की बात है तो ये है संस्कारों को रोकने का तरीका दुख के संस्कारों को भी रोकें सुख के संस्कारों को भी रोकें किस संस्कार दुख से बच जाएंगे तो व्यक्ति पुरुषार्थ करके तीन दुखों से तो बच सकता है चौथे से नहीं बच पाएगा उसकी चर्चा कल करेंगे अब समय समाप्त हो गया यहां कक्षा को विराम एक बार ओम बोलेंगे लंबे Oh.